मंत्र पाठ करेंगे ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह तक पच्चीसवां सूत्र पूरा हो गया था उससे आगे चलेंगे तो चार बातें बताई थी हेय हेय हेतु हानम हानोपाय चार में से तीन की बात पूरी हुई हेय हेय हेतु हानम अब चौथे का नंबर है हानोपाय उसकी बात शुरू करते हैं इसमें सूत्र की भूमिका अथ हानस्य अथ हानस्य कह कह प्राप्ति उपाय प्राप्ति उपाय इति भूमिका में ये प्रश्न उठाया कि अब ये बताएंगे कि हान की प्राप्ति का उपाय क्या है मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है अब ये बताएंगे चौथी बात मोक्ष तो बता दिया छब्बीसवें सूत्र में बोलिए विवेक ख्याति ही विवेक ख्याति अविप्लवा अविप्लवा हानोपाय हानोपाय कैसे पढ़ेंगे सत्व पुरुष सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति विवेक ख्याति सातु सातु अनिवृत्त अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना मिथ्या ज्ञाना प्लवते प्लवते कहते हैं विवेक ख्याति दो प्रकार की है एक है प्रारंभिक स्तर की नई नई मोटे स्तर की विवेक ख्याति और ये विवेक ख्याति क्या है इसको बताते हैं सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय ये है विवेक ख्याति सत्व का मतलब बुद्धि और बुद्धि जैसे सारे प्राकृतिक पदार्थ ये प्राकृतिक जितने भी पदार्थ हैं मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सारा का सारा प्राकृतिक एक विभाग में आ गया दूसरा है पुरुष पुरुष शब्द के दोनों अर्थ हैं जीव भी और ईश्वर भी ठीक है अब तीन वस्तु हो गई सत्व और पुरुष शब्द से तीन वस्तु हो गई प्रकृति जीव और ईश्वर ये तीन वस्तु हो गई सत्व पुरुष दो शब्दों का अर्थ फिर है अन्यता भिन्नता प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान तीन तत्वों की भिन्नता का ज्ञान पृथक ज्ञान प्रकृति ऐसी है जीवात्मा ऐसा है ईश्वर ऐसा है तीनों का अलग अलग ज्ञान स्पष्ट अलग अलग ज्ञान इसका नाम है विवेक ख्याति तो जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं उपदेश सुनते हैं चिंतन मनन करते हैं विचार करते हैं तो हमें तीनों चीजों का थोड़ा थोड़ा पता चलता है ईश्वर एक है सर्वव्यापक है न्यायकारी है निराकार है चेतन है आनंद स्वरूप है सृष्टिकर्ता है आदि आदि जीवात्मा अल्पज्ञ है अणुमात्र है छोटा सा है एक देशी है कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र है अच्छे बुरे कर्म करता है अच्छे बुरे फल भोगता है कभी बंधन में आता है कभी मोक्ष में जाता है जीव का पता चल गया प्रकृति जड़ है दुखदायक है इसमें कई प्रकार के दुख भरे हैं दुर्घटनाएं आंधी तूफान बाढ़ भूकंप सब कुछ होता रहता है प्रकृति भी समझ में आ गई इससे हमारे कोई इच्छाएं शांत होती नहीं ये सारा समझ में आ गया अब ये जो तीनों का अलग अलग ज्ञान हुआ इसका नाम है विवेक ख्या परंतु आगे कहते हैं सातु अनवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते जब ये प्रारंभिक स्तर पर हमको ज्ञान होता तीनों चीजों का उस समय मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ मिथ्या ज्ञान थोड़ा सा दब गया तो ये शुरू शुरू में जो ज्ञान हुआ इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान वो थोड़ी देर टिकता है फिर गायब हो जाता है जैसे लोग कभी शव यात्रा में शामिल होते हैं किसी की डेथ हो गई शव यात्रा में जाएंगे तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करेंगे सब संसार नाशवान है आज ये चला गया कल वो चला गया कल हम भी जाएंगे कोई हानि रहने वाला है सब संपत्ति छूट जाएगी फलाना और ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे शमशान घाट में जाएंगे उसका अंतिम संस्कार करेंगे तब तक तो ये ऐसी बातें चलेंगी उसका नाम शमशान वैराग्य शमशान घाट से बाहर निकलते ही एक किलोमीटर आगे जाएंगे फिर कहेंगे यार उसको पेमेंट नहीं मिली अब तक उसको याद दिलाया था बेकार आदमी पैसे नहीं देता छह बार तो कह चुके हैं देता नहीं पैसे अब दस दिन में नहीं आया पैसे तो कोर्ट केस करूंगा उस पर <laughs> सारा शमशान नारायण के गायब हो गया फिर कोर्ट केस की बात आ जाती है फिर लड़ाई झगड़े की बात आती है तो ये जो तत्व ज्ञान उसको हुआ था शाब्दिक ज्ञान थोड़ा सा उभरा था कि सब संसार नाशवान है सब यही रह जाएगा कुछ साथ में नहीं जाएगा वो शमशान घाट से बाहर निकलते ही एक किलोमीटर जाते जाते गायब हो जाता इस स्थिति में उसका मिथ्या ज्ञान हटा नहीं था थोड़ा सा दब गया था तो ऐसी स्थिति में जो हमको ज्ञान होता है ईश्वर का जीव का प्रकृति का संसार का वो प्लवत है वो गायब हो जाता है छूट जाता है नष्ट हो जाता है खो जाता है ये एक स्थिति है विवेक ख्याति की तत्व ज्ञान की फिर आगे पढ़िए यदा यदा मिथ्या ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम दग्ध बीज भावम बंध्य प्रसवम बंध्य प्रसवम संपद्यते संपद्यते तदा तदा विधूत विधूत क्लेश रजस क्लेश रजस सत्वस्य सत्वस्य परे वैशारद्ये परे वैशारद्ये परस्याम परस्याम वशीकार संज्ञायाम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय विवेक प्रत्यय प्रवाहो प्रवाहो निर्मलो निर्मलो भवती तो कहते हैं यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भाव जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ इसका अर्थ ये लगाना चाहिए अभी दग्ध बीज हुआ नहीं है उसके आसपास पहुंच गया है मतलब तत्व ज्ञान इतना अच्छा हो गया है सॉलिड हो गया है बहुत मजबूत हो गया है वर्षों तक हमने उसको अभ्यास किया और उसको अपने अंदर स्थिर किया टिकाया तो वर्षों तक करते करते करते वो जम जाता है जब ऐसा हो जाता है तब वो न प्रवत है फिर नहीं छूटता फिर मजबूत हो जाता है ऐसे एक व्यक्ति चिकित्सक डॉक्टर है वो चिकित्सा करता है तीस साल पैंतीस साल चालीस साल चिकित्सा करता है तो उसको सारी चिकित्सा फिंगर टिप्स पे हो जाती है सब उंगलियों को याद रहती है इस रोग में क्या देना इस रोग में क्या देना फटाफट फटाफट रोगियों को चिकित्सा करता जाता है दो मिनट में डायग्नोज कर लेता है फटाफट उसको दवाई देता है तो अब वो जो उसका चिकित्सा ज्ञान है वो स्थिर हो गया अब छूटता नहीं तो ऐसी ही बात यहां पर कह रहे हैं जब ये तत्व ज्ञान स्थिर हो जाता है लंबे समय तक व्यक्ति अभ्यास करता रहता है तो इतना पक्का हो जाता है तब ये मिथ्या ज्ञान बंध्य प्रसवम संपद्य थे अब ये हमारे भोग के संस्कारों को उत्पन्न नहीं कर सकता उनकी उत्पत्ति में असमर्थ हो जाता है मतलब हमारी बुद्धि को खराब करने में असमर्थ हो जाता है मिथ्या ज्ञान अब हमको संसार में नहीं घसीटेगा इतना वो नीचे दब गया कमजोर हो गया तब क्या होता है तदा विधूत क्लेश रजस सत्व से अब जो सत्व यानी बुद्धि चित्त आदि जो भी हमारा अंतकरण है उसके ऊपर जो क्लेशों की धूल थी अविद्या राग द्वेश आदि जो क्लेश दबे हुए ने दबा रखा था उसको वो विधूत धुल गया वो सारी धूल हट गई और चित्त एकदम साफ सुथरा हो गया एकदम फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान हो गया शुद्ध हो गया उस सत्व चित्त के परे वैशारध्य ऊंची बढ़िया शुद्ध अवस्था प्राप्त होने पर निर्मल अवस्था चित्त की प्राप्त होने पर एकदम बढ़िया साफ सुथरा हो गया सब राग द्वेष अविद्या हट गए तब परस्याम वशीकार संज्ञाया तब ऊंचा वशीकार संज्ञा वैराग्य हो गया यह अपर वैराग्य की बात चल रही है तो अपर वैराग्य का उच्च स्तर उसके हाथ में आ गया ऐसी स्थिति होने पर वर्तमान से यह सत्वस्य का विशेषण है षष्टी एक वचन तो जो इस तरह के स्वरूप में वर्तमान है चित्त अंतकरण उस चित्त का विवेक प्रत्यय प्रवाह तत्व ज्ञान के का जो प्रवाह है विवेक मान ज्ञान वास्तविक प्रत्यय मान ज्ञान वो जो तत्व ज्ञान हुआ कि ईश्वर ऐसा है जीव ऐसा है प्रकृति ऐसी है तीनों का स्पष्ट ज्ञान हो गया और खूब पक्का हो गया लंबे समय तक अभ्यास करते करते तो अब जो दिन भर उसके विचार चलते रहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति संबंधी वो इतना शुद्ध प्रवाह चलता है साफ सुथरा अब उसको मिथ्या ज्ञान नहीं होता वो हट जाता है और इतना शुद्ध प्रवाह चलता है विचारों का वो निर्मल हो जाता है शुद्ध हो जाता है फिर उसको विद्या नहीं भटका सकती उसका तत्व ज्ञान पक्का हो गया वो है अविप्लवा वो जो विवेक ख्याति है वो अविप्लवा है अब छूटेगी नहीं मजबूत हो गई तो एक डॉक्टर है रोज चिकित्सा करता रोगियों की जब वो खाना खाता है तो साबुन से हाथ धोएगा या नहीं क्या डॉक्टर बिना साबुन से हाथ धोए कभी खाना खाएगा <laughs> कभी नहीं खाएगा तो जैसे उसके दिमाग में कूट कूट के भर गया अच्छी तरह भर गया कि बिना साबुन से हाथ धोए खाना नहीं खा सकते सारा दिन रोगियों को चिकित्सा करते हैं वो तो हर पांच पांच दस दस मिनट में हाथ धोते हैं साबुन से एक रोगी का पट्टी वट्टी बांधी ड्रेसिंग की तुरंत हाथ धोएंगे फिर दूसरे रोगी को थोड़ा किया कुछ घाव वाव ठीक किया उस पर लगाई पट्टी वट्टी बैंडेज फिर हाथ धोएंगे वो तो बार बार हाथ धोते सारे दिन धोते रहते हैं तो जैसे डॉक्टर ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि बिना हाथ धोए खाना खा लो ऐसे इसका भी स्तर हो जाता है वो इतना पक्का हो जाता है वो संसार की ओर कभी मुड़ के देखेगा भी नहीं इतना पक्का हो जाता है उसका तो वो है अविप्लवा विवेक ख्याति जब ये तत्व ज्ञान का स्तर ऐसा बनता है स्थिर हो जाता है तो उसे पूरा दिन ऐसा दिखता है प्रकृति दुखदायक है जीव भी ऐसा ही धोखेबाज बेईमान है <laughs> घोटाले करता है सारा दिन झूठ बोलता है चोरी करता है छलगवट करता है प्रकृति भी बेकार है जीव भी बस ईश्वर ही ठीक है उसी को पकड़ के चलो उसका सारा दिन दिमाग ऐसा रहता है तो ये उसका विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मल हो जाता है शुद्ध हो जाता है इस स्तर पर वो सारा दिन जीता है आगे पढ़ेंगे सा विवेक ख्याति ही सा विवेक ख्याति ही अविप्लवा अविप्लवा हानस्य हानस्य उपाय उपाय इस स्तर की जो विवेक ख्याति है जैसा अभी बताया वो है पक्की वो टिक जाएगी वो नहीं हटेगी अब बस वही हान का उपाय है वही हमको मोक्ष तक पहुंचाएगी उससे पहले थोड़ा थोड़ा ज्ञान कभी कभी होता रहता है वो छूट जाता है वो हमको दूर तक नहीं ले जा पाए नहीं ले जा पाएगा और फिर बीच में अविद्या उत्पन्न हो जाएगी और थोड़ा सा तत्व ज्ञान उभरा था वो वापस दब जाएगा फिर बीच बीच में कोई घटना होगी थोड़ा सा उभरेगा फिर वो वापस दब जाएगा तो उससे मोक्ष नहीं होने वाला मजबूत स्थिति से मोक्ष होगा ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भाव दग्ध बीज भाव उपगम उपगम पुनश्च पुनश्च अप्रसव अप्रसव इति एषः इति एषः मोक्षस्य मार्गो मोक्षस्य मार्गो हानस्य उपायः हानस्य उपायः इति इति तो अब ये जो अविप्लव व्याख्याति आई उच्च स्तर की जिसमें तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर प्रकृति दुखदायक है जीवात्मा भी घोटालेबाज है बस ईश्वर ठीक है ये स्तर जब उसका टिक जाता है वर्षों तक ये उस का तत्व ज्ञान इस मिथ्या ज्ञान को दग बीज भाव के स्वरूप में प्राप्त करा देता प्राप्त प्राप्ति तो इससे मिथ्या ज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात अब पूरा नष्ट हो जाएगा पूरा दग्धबीज भाव हो जाएगा जल जाएगा बीज जैसे गेहूं के चने के बीज होते इसको भट्टी में जला दें भून दें तो अब उसको खेत में डालो तो अब नहीं अंकुरित होगा अब नहीं उगेगा उसका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य खत्म हो गया नष्ट हो गया तो इसी तरह से ये तत्व ज्ञान की जो अग्नि है ऊंचे तत्व ज्ञान की अग्नि ये अविद्या काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष राग इन सबको जला देती है नष्ट कर देती है और जले हुए बीज जैसा बना देती है तो जब वो सारे क्लेश जले हुए बीज जैसे हो जाते हैं तो फिर आगे अविद्या को पैदा नहीं कर पाते फिर पुनर्जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाते फिर भोगों की ओर हमको नहीं घसीट पाते पुनश्च अप्रसवा फिर उत्पन्न नहीं होते इति एष मोक्ष से मार्ग ये है मोक्ष का रास्ता हानस्य उपाय इति मोक्ष का उपाय ये है तो ये अविप्लवा विवेक ख्याति हाथ में आनी चाहिए जब तक ये नहीं आएगी अविद्यादि क्लेश नष्ट नहीं होंगे जब तक अविद्यादि क्लेश नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होंगे तब तक अगला जन्म चालू रहेगा अब सारा रास्ता क्लियर है आपको शाब्दिक रूप से स्पष्ट है समझ में आ रहा है बाकी तो प्रैक्टिकल की बात है जो जितना करेगा उसको उतना लाभ हो बोलिए विप्लव का मतलब क्या होता है नष्ट छूट जाना अच्छा। मिस खो जाना कोई चीज हाथ में आई और छूट गई खो गई उसका नाम है विप्लव बिगड़ जाना हाथ से निकल जाना उसको विप्लव कहते हैं और अविप्लव हाथ से छूटी नहीं मजबूत पकड़ के रखी है हमने वो छोड़ते नहीं हम उस चीज को पकड़ के रखते हैं तो ये जो पकड़ के रखते हैं ये हमको आगे पहुंचा देगी मान लो आप स्टेशन पर आए ट्रेन आई आपने डंडा पकड़ा ट्रेन का चढ़ने के लिए गेट का और ट्रेन अचानक झटका मार के तेज हो गई और डंडा हाथ से छूट गया तो आप प्लेटफॉर्म पर रह गए ट्रेन निकल गई ये विप्लव प्रॉब्लम और जब आपने ट्रेन आई रुकी और आपने कस के पकड़ा डंडा और फटाफट चढ़ गए डिब्बे में अब अब वो ट्रेन आपको आगे ले जाएगी अब नहीं छूटी ना ट्रेन अब ट्रेन हमारी पकड़ में है तो अब ट्रेन हमको आगे ले जाएगी तो ये अविप्लवा विवेक ख्याति हमको मोक्ष में ले जाएगी और अगर आई और छूट गई तो फिर विप्लव हो गया तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं और विवेक ख्याति बोले तो प्रकृति जीव और ईश्वर का ईश्वर का ज्ञान ज्ञान तीनों का ज्ञान तीनों का ज्ञान यानी विवेक ख्याति हाँ जी ये विवेक ख्याति शब्द का अर्थ है तीनों का अलग अलग ज्ञान इस ये जो विवेक शब्द है ना इसमें जो धातु है वो है विचिर विचिर पृथक भाव है इस धातु से विवेक शब्द बनता है तो विचिर धातु का अर्थ है पृथक पृथक अलग अलग अलग अलग समझना यह है विवेक ख्याति ख्याति का अर्थ है ज्ञान जानना समझना तो प्रकृति को अलग समझना प्रकृति इस तरह की जीवात्मा को उससे अलग समझना जीवात्मा इस तरह का है और ईश्वर को इन दोनों से अलग समझना ईश्वर ऐसा है तीनों का अलग अलग स्पष्ट ज्ञान हो जाना ये विवेक ख्याति ठीक है तो इस अविप्लव विवेक ख्याति से अविप्लव वैराग्य बनेगा पहले हाँ जो अविप्लव विवेक ख्याति होगी उससे वैराग्य पक्का होगा क्रम ये रहेगा पहले विवेक ख्याति पक्की होगी धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे वो पक्की हो जाएगी तो जैसे जैसे पक्की होती जाएगी वैसे वैसे वैराग्य भी पक्का होता जाएगा ये परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगी मान लो 20 प्रतिशत किसी को विवेक ख्याति हुई तो 20 परसेंट वैराग्य हो जाएगा वो उसको दोहरा के दोहरा के पक्का करता रहेगा तो 20 परसेंट यदि वैराग्य विवेक ख्याति पक्की होगी तो वैराग्य भी 20 परसेंट पक्का हो गया फिर उसने और बढ़ाया तत्व ज्ञान को विवेक ख्याति को फिर वो 30 परसेंट हो गया तो वैराग्य भी 30 परसेंट हो गया तो जितनी जितनी विवेक ख्याति बढ़ती जाएगी उतना उतना वैराग्य बढ़ता जाएगा फिर चालीस हो गया पचास हो गया साठ हो गया अस्सी हो गया वैराग्य भी उतना उतना बढ़ता जाएगा अस्सी परसेंट हो गया तो पिछले अभ्यास से उसको पक्का पक्का साथ साथ करते जाएंगे अगर अभ्यास नहीं किया तो वो अस्सी तक पहुंच के फिर साठ पे आ जाएगा उसको अभ्यास से पक्का करेंगे दोहराते रहो रोज सारा दिन यही काम करो ये दुनिया बेकार है दुखदायक है धूर्त लोग हैं दुष्ट लोग हैं धोखेबाज हैं बेगमान है सारा दिन उल्टे सीधे काम करते हैं और घोटाले करते हैं और सच्चाई का साथ नहीं देते दुष्टों का साथ देते हैं ऐसे सारे दिन आपको दोहराना पड़ेगा तब जाके ये सच्चाई दिमाग में टिकेगी तो जैसी जैसी वो विवेक ख्याति टिकती जाएगी वैसे वैसे वैराग्य भी टिकता जाएगा वो पक्का होता रहेगा ऐसे करते करते सौ परसेंट तत्व ज्ञान होगा विवेक ख्याति तो वैराग्य भी सौ परसेंट हो जाएगा फिर उसको हम बार बार दोहरा के पक्का करेंगे सौ परसेंट को फिर जब वो सौ परसेंट विवेक ख्याति पक्की हो जाएगी तो वैराग्य भी सौ परसेंट पक्का हो जाएगा जब ये पक्का हो जाएगा फिर समाधि में प्रवेश करेंगे समृद्धियात्मा फिर समृद्धियात्मा प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों की अनुभूति करेंगे प्राकृतिक पदार्थों की और जीवात्मा की वो हो गया उसके बाद फिर जीवात्मा भी ऐसा ही है उसमें भी कोई आनंद नहीं तो उससे भी वैराग्य हो जाएगा प्रकृति के सत्पूर्ण से भी जीवात्मा से भी दोनों से वैराग्य हो जाएगा उसका नाम पर वैराग्य है फिर पर वैराग्य आएगा उससे फिर ईश्वर में रुचि बढ़ेगी अब तेजी से बढ़ेगी खूब बढ़ेगी ये देख लिया जीव को और प्रकृति को इसमें कोई दम नहीं है ईश्वर को पकड़ो बस वही हमारा कल्याण करेगा वही जन्म मरण से छुड़ाएगा वही आनंद देगा वही मोक्ष देगा फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे पूरी तरह से बात को एक दृष्टांत से हमारे गुरु जी ने समझाया था बहुत साल पहले उन्हीं का दृष्टांत सुनाता हूं गुरु जी ने सुनाया कि मान लो ये छोटा बच्चा है चार साल का पांच साल का और उसके माता पिता बच्चे को मेले में लेकर गए मेला दिखाने और मेले में थी भीड़ अब भीड़ में बच्चा की उंगली छूट गई वो माता पिता से अलग हो गया फिर उसने देखा अरे मेरे माता पिता कहां गए छूट गए तो रोने लग गया क्योंकि वो माता पिता से बिछुड़ के दूर रह नहीं सकता उसको उनको वही रक्षक दिखते हैं बच्चे को तो फिर किसी व्यक्ति ने देखा ये बच्चा रो रहा है और इसके माता पिता अलग हो गए तो बच्चों का अच्छा तुम रो मत मैं ढूंढता हूं तुम्हारे माता पिता को ढूंढता हूं वो रो जाए वो इतना कहने से थोड़ी चुप हो जाए <laughs> नहीं नहीं नहीं मुझे तो मां चाहिए वो कहता अच्छा तुम चुप रहो शोर मत करो रो मत अच्छा ये ये जलेबी लो जलेबी खाओ मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ वो कहता नहीं मुझे जलेबी नहीं चाहिए मुझे माँ चाहिए फिर कहता अच्छा ये खिलौना लो मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ कहता नहीं खिलौना नहीं चाहिए मुझे तो माँ चाहिए अब आप उसको कितना भी प्रलोभन देते जाओ वो स्वीकार करेगा नहीं उसको क्या चाहिए माँ बस माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो गुरु जी ने ऐसा बताया कि पर वैराग्य में व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है उसको सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब उसको कहो लोग इतना पैसा देता हूं एक करोड़ रुपया देता हूं वो कहता नहीं मुझे ईश्वर चाहिए एक करोड़ नहीं चाहिए दस करोड़ नहीं चाहिए मुझे ईश्वर चाहिए अच्छा तुमको एक संस्था का अध्यक्ष बना देता हूं आ जाओ बोले संस्था का अध्यक्ष नहीं बनना मुझे ईश्वर चाहिए संस्था नहीं चाहिए सम्मान नहीं चाहिए कोई अखबार में फोटो नहीं चाहिए कोई टेलीविजन में प्रवचन नहीं देना मुझे विदेश यात्रा नहीं करनी मुझे कोई पुस्तक नहीं छापनी मुझे कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए वो दे सकते हो तो लाओ वो और कोई दे नहीं सकता इसलिए सब भाग जाते हैं वहां से तो पर वैराग्य में फिर ये स्थिति आती है मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वो है अविप्लव ये स्तर है पक्का मजबूत वाला तत्व ज्ञान का तो उसको फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति फिर असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है तब उसको ईश्वर की अनुभूति होती है ईश्वर की अनुभूति से उसको फिर जो ज्ञान मिलता है जो आनंद मिलता है वो असली चीज उस असली तत्व ज्ञान से वैराग्य से आनंद के संस्कारों से फिर ये अविद्यादि मिथ्या ज्ञान ये दग्धबीज होता है तो दग्धबीज होगा असंप्रज्ञा समाधि के बाद पहले की स्थितियों में वो दब जाएगा कमजोर हो जाएगा ढीला पड़ जाएगा मरेगा नहीं मरेगा तो उसी से असंप्रज्ञा समाधि से जब ईश्वर का ज्ञान मिलेगा उसमें विशेष ज्ञान मिलेगा और इतना अच्छा पक्का होगा वो वो इस अविद्या को राग द्वेष को काम क्रोध लोभ को पूरा मार डालेगा पूरा नष्ट कर देगा बस तब फिर मोक्ष होगा ये इस सूत्र में बताना चाहते हैं ठीक है हाँ आगे चले जी ये आपने कहा कि आशा बहुत आ जाती है और फिर अगर उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की बात आ जाए दिमाग में मतलब प्राय वही तो वैराग्य को उत्पन्न करेगी परंतु वह द्वेष को भी तो उत्पन्न द्वेष को रोकना सच्चाई को स्वीकार करना द्वेष को रोकना आपके हाथ में एक स्टील का ग्लास अगर ये छूट गया फर्श पे गिर गया तो क्या टूट जाएगा नहीं टूटेगा अगर कांच का ग्लास है और वो हाथ से छूट गया और फर्श पे गिरा तो तो जब आप स्टील का ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो चलता है इतनी सावधानी नहीं रखते आप सोचते हैं छूट भी गया तो कोई परवाह नहीं टूटेगा नहीं फिर जब कांच का गिलास यूज करते हैं तो सावधान रहते हैं एक छूट गया तो टूट जाएगा क्या आप कांच के गिलास का प्रयोग नहीं करते करते थोड़ा सावधानी से करते ऐसे ही लोगों से हमको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा पर जरा सावधानी से करना पड़ेगा ये कांच का गिलास है छूट गया तो काट डालेगा <laughs> हाथ पाँव तोड़ देगा इसलिए जरा सावधानी से व्यवहार करना तो जैसे कांच के गिलास का हम प्रयोग करते हैं सावधानी से ऐसे ही संसार के लोगों से हम व्यवहार करते हैं जरा सावधानी से इसको जरा भी छेड़ा तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे इसलिए झगड़ा मत करो चुपचाप प्रेम से निपटा लो और अपना चलते जाओ तब ऐसे करना पड़ेगा द्वेष नहीं करना सावधान रहना अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो लोग कदम कदम पे आपको धोखा देंगे आपकी संपत्ति छीन लेंगे आपको मूर्ख बनाएंगे आपका शोषण करेंगे तो जीना कठिन है इसलिए अपनी सुरक्षा रखते हुए सावधानी से चलना यही तत्व ज्ञान यही करना होगा पहले के जितने ऋषि हुए उन सब ने यही किया आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं आगे जो करेंगे उनको भी यही करना है और कोई ऑप्शन नहीं दूसरा कोई विकल्प नहीं ये तत्व ज्ञान है यही मोक्ष का उपाय है ठीक है इस तरह से चलेंगे आगे चले चलिए ये चार बातें पूरी हुई अब सत्ताईसवा सूत्र देखिए बोलिए तस्य तस्य सप्तधा सप्तधा प्रांत भूमि प्रांत भूमि प्रज्ञा प्रज्ञा सूत्रार्थ कर दिया कि नहीं किया छब्बीस का नहीं किया सूत्रार्थ बोलता हूं विवेक ख्याति अविप्लव जो न छूटने वाली स्थिर मजबूत पक्की विवेक ख्याति है जो बढ़िया पक्का तत्व ज्ञान है वही हानोपाय हान का उपाय है मोक्ष तक पहुंचाने वाला है जो कच्ची विवेक ख्याति है वो मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगी थोड़ी दूर ले जाएगी फिर छोड़ देगी फिर हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे इसलिए पक्की विवेक ख्याति हमें प्राप्त करनी है वो हमको मोक्ष तक ले जाएगी अब कहते हैं सत्ताईसवें सूत्र में सूत्रार्थ सुनिए सत्ताईस का तस् उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति को ये अविप्लवा विवेक ख्याति प्राप्त हो गई उस व्यक्ति की कल आप पूछ रहे थे ना कि उसको पता कैसे चलेगा कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा मोक्ष होगा कि नहीं होगा ये वो सूत्र आ गया तो जिसको विवेक ख्याति पक्की हाथ में आ गई उस व्यक्ति की सप्तधा सात प्रकार की प्रांत भूमि उच्च स्तर की प्रज्ञा बुद्धि होती है उसकी उच्च स्तर की सात प्रकार की बुद्धि होती है अर्थात सात प्रकार की उसकी अनुभूतियां होती है वो अपनी बुद्धि से सात प्रकार के अनुभव करता है वो सात अनुभव अब बताए जाएंगे इस सूत्र के भाष्य में भाष्य पढ़िए तस्य प्रत्युदित ख्याते प्रत्युदित ख्याते प्रति आमनाय प्रति आमनाय सूत्र में जो तस्य शब्द है तस्य इति इसका यह अर्थ है प्रत्युदित ख्याते तस्य है षष्ठी विभक्ति और प्रत्युदित ख्याते ये भी षष्ठी है तो इसका अर्थ है कि जिसकी ख्याति उदय उदय हो चुकी है कौन सी ख्याति हाँ, हाँ। जिसको अविवेक अविवेक अविप्लवा विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है उसके लिए तस्य शब्द का प्रयोग है तो जिसको ऊंचा तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया जिसको मोक्ष का उपाय हाथ में आ गया उस व्यक्ति की ये तस्य का अर्थ है प्रति आमनाया उसके प्रति पाठ है तस्य शब्द का पाठ उस व्यक्ति के प्रति है आमनाय का अर्थ है पाठ अर्थात जो शब्द बोला गया सूत्र में ये पाठ ये पाठ ये शब्द उसके लिए है आगे बढ़ते हैं सप्तधा इति सप्तधा की अशुद्ध अशुद्ध अशुद्धि अशुद्धि आवरण आवरण मल मल अपगमात अपगमात चित्तस्य चित्तस्य प्रत्ययांतरानुत्पादे प्रत्ययांतरानुत्पादे सति सति सप्त प्रकारा सप्त प्रकारा एव एव प्रज्ञा प्रज्ञा विवेकिनो विवेकिनो भवति भवति सप्तधा जो शब्द है सूत्र में उसका अर्थ खोलते हैं सप्तधा थी सप्तधा का ये अर्थ है अशुद्धि आवरण मल अपगमात अशुद्धि रूपी मल का आवरण वो अविद्या अशुद्धि अविद्या अविद्या ही तो अशुद्धि रूपी जो मल है उसका आवरण जो ढक्कन लगा हुआ था चित्त पर उसके अपगमात हट जाने से अवगम हट जाना उसके हट जाने से चित्तस्य चित्त के प्रत्ययांतर दूसरे ज्ञान अर्थात लौकिक ज्ञान अनुत्पादे सती अब उत्पन्न नहीं होते क्योंकि अविद्या हट गई जब अविद्या थी तब दूसरे ज्ञान उत्पन्न होते थे संपत्ति जमा कर लो पैसे कमा लो सोना चांदी खरीद लो बंगला खरीद लो इधर इन्वेस्ट कर दो इधर पैसे डाल दो प्लॉट खरीद लो ये लौकिक विचार जो उठते थे सांसारिक सुख भोगने वाले संपत्ति जमा करने वाले अब अविद्या के हट जाने से अब वो उत्पन्न नहीं होते अनुत्पादे सती उनकी उत्पत्ति न होने पर सप्त प्रकारा एवं प्रज्ञा विवेकिनो भवती उस विवेकी व्यक्ति की जिसको विवेक ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान हो गया ऊंचा उसको सात प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है सात प्रकार की अनुभूतियां होती हैं उस व्यक्ति को जिसकी अविद्या हट गई अब हम कह तो रहे हैं हट गई और ये संसार में पैसे कमाना सब अविद्या है कह तो रहे हैं पर लोगों के पल्ले थोड़ी पड़ेगा <laughs> लोगों के समझ में नहीं आएगा लोग तो हमको पागल कहेंगे <laughs> मूर्ख लोग ये कहते पैसे मत कमाओ <laughs> क्या दिमाग खराब है इनका लोग तो ऐसा कहेंगे खैर कहने तो हमें उनकी चिंता नहीं हम तो ऋषियों को ऊंचा मानते हैं वेदों को ऊंचा मानते हैं हम जनता को ऊंचा नहीं मानते ईश्वर भूल नहीं करता वो सर्वज्ञ है और ईश्वर के इन चार वेदों को ऋषियों ने पढ़ा और संसार में प्रत्यक्ष अनुभव किया तो उनका अनुभव भी और शब्द शास्त्र का ज्ञान भी वो एक जैसा है और वो ऋषियों के वचन है ये इसलिए हम उसको ऊंचा मानते हैं इसमें भूल नहीं है जनता के विचार में भूल है वो उल्टा समझती है तो क्योंकि तत्व ज्ञानी व्यक्ति की अविद्या हट चुकी है इसलिए अब उसको ये भोग संपत्ति के विचार नहीं आते कि पैसे कमाओ और खाना पीना और ये सब करो तो ये सब हट जाने पर उसकी सात प्रकार की ऊंची बुद्धि उत्पन्न होती है अर्थात अनुभूतियां होती हैं तो वो कैसी कैसी होती हैं वो बताते हैं तद्यथा तद्यथा जैसे कि पहली परिज्ञातम हेयम परिज्ञातम हेयम न अस्य न अस्य पुनः पुनः परिज्ञेयम परिज्ञेयम अस्ति अस्ति ये उसकी पहली अनुभूति है कि हेयम परिज्ञातम हे था छोड़ने योग्य दुख दुख हेयम दुख छोड़ने योग्य दुख है तो वो कहता है हेयम परिज्ञातम मैंने दुख को जान लिया संसार में कहां कहां दुख छिपा है कैसा कैसा छिपा है कितने प्रकार का है कैसे कैसे रूप बदल के आता है कैसे कैसे हमको बहकाता है ऐसे ऐसे बड़े प्रलोभन आते हैं जो हमको घसीट ले जाते हैं संसार में तो उसको पूरा समझ में आ गया कि दुख कहां कहाँ छिपा है जिसको तत्वज्ञान ऊंचा हासिल हो गया उसको हरेक को नहीं दिखता उसको तो सुख दिखता है जैसे मैंने अभी कहा कि लोग पैसा कमाने में सुख मानते हैं किसी संस्था का अध्यक्ष बनने में सुख मानते हैं और उनको बड़े बड़े प्रलोभन मिलते हैं चलो इंग्लैंड में चलते हैं एक नया गुरुकुल खोलेंगे आपको वहां का आचार्य बना देंगे <laughs> ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं और आपको अमेरिका ले चलते हैं वहां एक बड़ी संस्था बना देंगे आपको वहां का चीफ बना देंगे बस आप वहां काम करो तो इस व्यक्ति को दिखता है कि अमेरिका की संस्था में भी दुख है भले ही मुझे चीफ बना देंगे वहां भी दुख है और इंग्लैंड में नया गुरुकुल खोल के मुझे वहां का आचार्य बनाएंगे उसमें भी दुख है और मैसूर ले जाओ बेंगलोर ले जाओ ऊटी ले जाओ कश्मीर ले जाओ कहीं ले जाओ कहीं पर भी सुख नहीं है उसको सब जगह दुख दिखता है तो ये उसकी पहली अनुभूति है न धन में सुख है न संपत्ति में न सम्मान में न अध्यक्ष पद में न कोई संस्था संचालन में ये सब हानिकारक है दुखदायक है ऐसा उसको दिखता है फिर वो कहता है कि सारा दुख मैंने समझ लिया कहां कहां दुख छिपा है अस्य पुनः परिजयम न अस्ति अब और कुछ जानने को बचा नहीं अब कोई और परिस्थिति ऐसी नहीं बची जहां दुख छिपा हो और मेरी समझ में नहीं आया हो मुझे सब समझ में आ गया कहां कहां कैसा कैसा दुख छिपा है उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज है इसलिए वो कहीं नहीं फंसता ना अध्यक्ष पद में फंसता है ना वो देश विदेश में फंसता है कहीं नहीं फंसता न संपत्ति में ये पहली अनुभूति हो गई दूसरी क्षीणा क्षीणा हेय हेतव हेय हेतव न पुनः न पुनः एतेषाम एतेषाम क्षेत्रव्यम अस्ती तो दूसरी अनुभूति ये है कि हेय हेतव दुख के जो कारण थे दुख के कारण क्या क्या बताए थे दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण तो जन्म लेना दृष्टा और दृश्य का संयोग आत्मा और शरीर आदि का संयोग ये संयोग दुख का कारण है संयोग हुआ और दुख आया जन्म लिया और दुख आया तो ये एक था दुख का कारण फिर इसका भी एक और कारण बताया था अविद्या तस् हेतु और अविद्या संयोग क्यों हुआ इसका कारण अविद्या तो अविद्या बनी रहती है बार बार जन्म होता रहता है तो दुख के कारण दो बताए सीधा कारण संयोग अर्थात जन्म लेना और उसका भी कारण अविद्या तो कहते हैं हे हे हेतव क्षीणा ये सारे मार डाले क्षीण कर दिए कमजोर कर दिए नष्ट कर दिए खत्म कर दिए अब अविद्या नहीं बची अविद्या सब मार दी और जब अविद्या ही हट गई तो संयोग अगला संयोग भी बंद हो जाएगा अगला संयोग होगा नहीं क्योंकि कारण के हटाने से कार्य हट जाता अगले जन्म का कारण था अविद्या वो हमने मार डाली तो अगला जन्म भी खत्म और अविद्या भी खत्म इस तरह से इनको मार डाला है न पुनः एतेषाम क्षेत्रव्यम अस्थि अब इनको और पीटने की जरूरत नहीं ये पूरे मर चुके जो आदमी जिंदा हो बेहोश हो उसको तो और पीटना चाहिए ताकि पूरा मार डाले दुश्मन को <laughs> दुश्मन को पूरा मारना चाहिए अधूरा नहीं अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए वो वापस फिर जाग जाएगा तो जिस दुश्मन को मारना है उसको पूरा मार के छोड़ना चाहिए और जब पूरा मर गया अब मारने की जरूरत नहीं अब पीटने की आवश्यकता नहीं तो ये हमारे शत्रु थे संयोग और अविद्या इनको पूरा मार डाला अब और पीटने की आवश्यकता नहीं ये उसकी दूसरी अनुभूति है मतलब माई वर्क इज कंप्लीट मेरा काम पूरा हो चुका है अब कुछ नहीं करना ये अनुभूति है तीसरी साक्षात कृतम साक्षात्कृतम निरोध समाधिना निरोध समाधिना हानम हानम निरोध समाधि से अर्थात असंप्रज्ञा समाधि से वो अंतिम पांचवी अवस्था चित्त की निरुद्ध अवस्था उस निरोध अर्थात असंप्रज्ञा समाधि से हानम साक्षात्कृतम मोक्ष का साक्षात कर लिया है मोक्ष में जो आनंद मिलेगा वो मिल चुका मुझे इससे पता चलता है कि असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का आनंद मिल चुका यही आनंद मोक्ष में होगा यही असंप्रज्ञा समाधि में तो ईश्वर का आनंद दो अवस्थाओं में मिलेगा या तो असंप्रज्ञा समाधि में या फिर मोक्ष में बस और कहीं नहीं बाकी तो प्रकृति का ही मिलेगा सत्वगुण का वो अलग अलग स्तर का होगा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्म फल के अनुसार तो समाधि से हमने मोक्ष का आनंद अनुभव कर लिया मोक्ष की क्या स्थिति होगी पूरी समझ में आ गई चौथी बात भावितो तो विवेक ख्याति विवेक ख्याति रूपो रूपो हानोपाय हानोपाय और हान का जो उपाय था मोक्ष का उपाय विवेक ख्याति रूपी उपाय जो कि अव्यवलवा मजबूत तो वो उत्पन्न हो चुका है वो हमारे हाथ में आ चुका है पूरा हथियार हमारे कंप्लीट है सारे हथियारों से लेस होकर के चल रहे हैं युक्त होकर के चल रहे हैं हमारा काम पूरा हो चुका ये चार अनुभूतियां उसको हो गई ऐशा चतुष्टयी चतुष्टी चतुष्टयी कार्य विमुक्ति कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया प्रज्ञाया तो ये चार प्रकार की बुद्धि की कार्य विमुक्ति है अर्थात बुद्धि से जो हमने चार काम करने थे वो कंप्लीट हो गई और बुद्धि निवृत्त हो गई जाओ भाई छुट्टी तुम्हारा काम पूरा हो गया जाओ जैसे वर्कर को आठ घंटे काम करवा लिया ना फिर तो अच्छा आज का काम पूरा हो गया जाओ छुट्टी घर जाओ खाओ पियो सो जाओ कल फिर आ जाना ऐसे उसकी छुट्टी हो गई बुद्धि की तो जो रिसर्च का वर्क था खोजबीन का गहराई में जाने का निर्णय लेने का सब विचार करने का हम्म, ये चार प्रकार के काम पूरे हो गए जो बुद्धि से लेने थे आगे चलते चित्त विमुक्तिस्तु चित्त विमुक्तिस्तु त्रयी त्रयी अब चित्त के जो रोल थे वो तीन प्रकार के थे ये बुद्धि के चार काम थे वो पूरे हो गए अब चित्त वाले तीन काम है उसकी बात और सुनिए कुल मिला के पांचवा चरिताधिकारा चरिताधिकारा बुद्धि बुद्धि अब देखो चित्त के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये चलता है बुद्धि थे अनयायती बुद्धि जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो बुद्धि है इस व्युत्पत्ति से चित्त का नाम बुद्धि रख सकते हैं कोई समस्या नहीं तो शब्द को देखना है प्रसंग को देखना है बुद्धि शब्द बुद्धि शब्द चित्त के लिए भी आ सकता है बुद्धि शब्द महातत्व के लिए भी आ सकता है बुद्धि शब्द सारे जड़ पदार्थों का प्रतिनिधि भी हो सकता है तो अलग अलग प्रसंग से वक्ता के अभिप्राय को ध्यान में रखकर उस शब्द का अर्थ निकालना चाहिए विशेष रूप से तो बुद्धि निर्णय के लिए और चित्त स्मृतियों के लिए हाँ जी हाँ हाँ ठीक बात है अब वो तो थी वस्तु की बात यहाँ है शब्द की बात ये जो बुद्धि शब्द है यहाँ शब्द को बुद्धि शब्द को चित्त वस्तु के लिए प्रयोग किया यहाँ ये कहना चाहता हूँ पहले वो निर्णायक जो तत्व है अंतकरण उपकरण जो है महातत्व पहले उसके लिए प्रयोग था बुद्धि अब ये चित्त नामक अंतकरण के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग है ये तो शब्द प्रयोग की बात है कभी किसी वस्तु के लिए कोई शब्द प्रयोग कर देते हैं किसी के लिए कोई कर देते हैं तो कह रहे हैं चरिताधिकारा बुद्धि जो हमारा चित्त है उस पर गुणों का अधिकार दबाव प्रेशर खत्म हो गया जैसे लोग कहते हैं ना भाई मैं क्या करूं मेरा मन नहीं मानता मुझे मन घसीट के ले जाता है इसको कहते हैं अधिकार गुणों का अधिकार दबाव प्रेशर तो ये अब खत्म हो गया अब वो ये महसूस नहीं करता कि साहब क्या करूं मेरा मन नहीं मानता कोई समस्या नहीं मन कैसे नहीं मानता है? मन जड़ है या चेता तो वो क्यों नहीं मानेगा आपकी कार जड़ है या चेता वो मानती है तो मन क्यों नहीं मानता <laughs> वो भी तो जड़ है कार भी जड़ है मन भी जड़ है जब कार मानती है तो मन भी मानेगा दोनों मानेंगे पर आम आदमी की अनुभूति नहीं है साधारण व्यक्ति यही मानता है कि साहब क्या करूं मैं बहुत मजबूर हूं मैं नहीं चाहता तो भी मैं कर डालता हूं मेरा मन नहीं मानता मुझे घसीट ले जाता है न चाहते हुए भी मैं कर बैठता हूं और बाद में पछताता हूं कि मैंने गलती की तो ये जो समस्या है साधारण मनुष्यों की ये उसकी समस्या नहीं है उसका मन के ऊपर बिल्कुल वैसा अधिकार है जैसा आपका कार के ऊपर सौ परसेंट आप जैसा चाहेंगे कार वैसी चलाएंगे दाएं मोड़ेंगे तो दाएं मुड़ेगी बाएं मोड़ेंगे तो बाएं मुड़ेगी पूरा आपके नियंत्रण में कार उसका मन उसके नियंत्रण में तो अब भोगों का जो दबाव था भोगों की प्रवृत्ति का दबाव के ये खा लो वो पी लो वैसे जमा कर लो वैसे संपत्ति कमा लो वो नाम कमा लो उसका चेला बना लो उसको यूं कर लो सब खत्म कोई समस्या नहीं ये एक अनुभूति हुई पांचवी छठी गुणा गुणा गिरी शिखर गिरी शिखर कूटच्युता कूटच्युता इव इव ग्रावाणो ग्रावाणो निरवस्थाना निरवस्थाना स्वकारणे स्वकारणे प्रलय अभिमुखा प्रलय अभिमुखा सह सह तेन तेन अस्तम अस्तम गच्छन्ति गच्छन्ति तो यहाँ कहना चाहते हैं एक उदाहरण देकर समझाया है गिरी शिखर कूट चिता ग्रावाणा इव गिरी माने पर्वत पहाड़ शिखर माने चोटी पहाड़ की चोटी पर कुछ पत्थर रखे थे छोटे मोटे पत्थर पड़े थे और वो कूट चिता उसके किनारे से गिर पड़े पहाड़ की चोटी के किनारे से नीचे लुढ़कने लगे गिरते आए तो ग्रावाणा जो पत्थर है उनके तुल्य जैसे पहाड़ की चोटी पर रखे पत्थर वहां से खिसक जाते हैं और नीचे घाटी की तरफ लुढ़कते जाते हैं उसी के समान उसी के समान गुणा जो सत्वरजतम गुण है कौन से गुण सत्वरजतम जो मेरे शरीर में विद्यमान है तीन शरीर बताए थे ना हम्म। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तो इसमें जो कारण शरीर है वो तो है गुण हम्म। सत्वरजतम ये तो है कारण शरीर अब ये कारण शरीर दो शरीरों के अंदर उपादान कारण के रूप में बैठा है जैसे कपड़े में धागे उसका कारण है ठीक है कपड़ा कार्य द्रव्य है धागे उसका कारण द्रव्य है तो स्थूल शरीर भी सत्वरेतम से बना है सूक्ष्म शरीर भी सत्वरेतम से बना है तो सत्वरेतम जो गुण है ये दोनों शरीरों का उपादान कारण है तो ये अब वैसे ही लुढ़कते जा रहे हैं प्रलय अभिमुखा प्रलय की तरफ जा रहे हैं स्व कारण प्रलय अभिमुखा ये अपने कारण की ओर जा रहे हैं अब ये कारण में लीन हो जाएंगे तेन सह अस्तम गच्छति और इन गुणों के साथ साथ ये जो चित्त है ये भी इनके साथ साथ लुढ़क रहा है और ये भी अब प्रलय को प्राप्त होगा अर्थात सारे शरीर टूट फूट के खत्म हो जाएंगे स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाएगा मरने के बाद जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक तो ठीक है जब वो मरेगा शरीर छूटेगा तो स्थूल शरीर के अंदर जो सत्वरतम है वो भी वापस चले जाएंगे और जो सूक्ष्म शरीर में सत्वरतम है वो भी टूट टूट के वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे मूल स्वरूप सत्वर तमस इस रूप में आ जाएंगे और ये दोनों शरीर नष्ट हो जाएंगे तो इसके साथ साथ चित्त भी नष्ट हो जाएगा ये दूसरी चित्त वाली तीन में से दूसरी अनुभूति सात में से छठी ठीक है पंक्ति ठीक समझ में आ गई आगे पढ़ते हैं न च एशाम न च एशाम प्रविलीना नाम प्रविलीना नाम पुनः पुनः अस्ति अस्ति उत्पाद उत्पाद प्रयोजन प्रयोजन अभाव अभाव इति बस ये वो छठी अनुभूति जो ये कहती है मेरा अगला जन्म कल कह रहे थे ना कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा ये छठी अनुभूति है इसमें लिखा है इसमें लिखा है एशाम प्रविलीना नाम पुनः उत्पाद न अस्ति ये जो सारे शरीर मेरे टूट फूट के नष्ट हो जाएंगे अब ये दोबारा पैदा नहीं होंगे मतलब मेरा अगला जन्म नहीं होगा ये छठी अनुभूति जिसमें गई बात उसको पता चल जाएगा ये मेरा आखिरी शरीर बस अब मेरा काम पूरा हो चुका है एक शरीर छोड़ना मात्र बाकी काम है जब तक भगवान ने पिछले ताकत दे रखी है पिछले कर्मों के फल से तब तक तो जिए और जब ये खत्म हो जाएगी तो छोड़ देंगे बस फिर मोक्ष में जाएंगे फिर अगला जन्म नहीं होगा ये उसको पता चल जाएगा जैसे बताया था भूख लगती है तो पता चलता है फिर खाना खाते हैं तो पता चलता है फिर भूख खत्म हो जाती है तो पता चलता है कि अब और भूख नहीं ऐसे ही संसार में जन्म लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी और आपको पता चलेगा बस और जन्म नहीं चाहिए जब नहीं चाहिए तो भगवान जबरदस्ती थोड़ी थोपेगा नहीं चाहिए तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है मत खाओ भूख नहीं है तो मत खाओ संसार में जन्म लेने की इच्छा नहीं है तो मत लो जाओ मोक्ष इस तरह से उसका मोक्ष हो जाएगा और फिर अगला जन्म नहीं होगा क्यों नहीं होगा प्रयोजन अभाव अब प्रयोजन ही नहीं रहा अगला जन्म लेने का दो प्रयोजन थे दोनों पूरे हो गए पिछले कर्मों का फल भोगना था वो पूरा हो गया मोक्ष की योग्यता बनानी थी वो बना ली तो अब क्यों जन्म लेंगे अब तो मोक्ष में जाएंगे इसलिए उसका अगला जन्म नहीं होगा और सातवीं अनुभूति है एतस्याम एतस्याम अवस्थायाम अवस्थायाम गुण संबंध गुण संबंध अतीत अतीत स्वरूप मात्र स्वरूप मात्र ज्योति ज्योति अमल अमल केवली केवली पुरुष पुरुष इति इति तो इस स्थिति में इस स्थिति में एतस्याम अवस्थायाम जब वो इस स्थिति में आ जाता है बस अब ये मेरा अंतिम शरीर है इसके बाद अगला जन्म नहीं होगा मोक्ष की सारी योग्यताएं बना ली जो उपाय करने थे कर लिए दुख को जितना समझना था समझ लिया सब काम कंप्लीट हो चुका है तो इस अवस्था में गुण संबंध अतीत अब गुणों के संबंध से वो परे हो गया छूट गया तो अब इसके दो अर्थ लगाएंगे एक तो जीवित अवस्था में जब तक जीवित है ठीक है तो वो ऐसा अनुभव करेगा कि अब मुझ, मुझ पर गुणों का कोई दबाव नहीं है अब गुणों से मुझे क्या लेना देना बस मैं तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं हम्म। सत्यार संस्कार विधि में कहा लिखा है स्वामी दयानंद जी ने सन्यासी जो है वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है उसको जीने में कोई राग मोह नहीं होता वो तो मरने की तैयारी में बैठा है भगवान कब मोह आएगी मैं तो तैयार बैठा हूं <laughs> उसको संसार में कोई राग नहीं कोई मोह नहीं तो ये मरने के लिए तैयार बैठा कि जब मौत आएगी चल देंगे मोक्ष में यहां क्या करना है देख तो लिया यहां <laughs> तो इस प्रकार से वो गुण संबंध अतीता जब तक जीवित रहेगा वो गुणों से कोई रुचि नहीं रखता इनके संबंध से छूट करके रहता है कुछ भी उसको राग द्वेष संसार में नहीं होता स्वरूप मात्र ज्योति वो अपने स्वरूप मात्र ज्योति वाला अपने शुद्ध स्वरूप वाला ज्योति माने चेतन ज्ञानवान प्रकाशमान ज्योति का अर्थ है प्रकाश प्रकाश का अर्थ है ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वरूप वाला चेतन स्वरूप वाला अपने स्वरूप में मस्त रहता है प्रकृति नहीं चाहिए बस मैं अपने चेतन स्वरूप में ठीक ठाक हूं ऐसा वो रहता है अमला मल से रहित सब अविद्यादि मल उसके छूट गए केवली वो अकेला हो जाता है अर्थात वो जीवात्मा शरीर आदि पदार्थों से अपने को अलग महसूस करता है मैं आत्मा हूं ये शरीर मुझसे अलग ऐसे इस तरह का वो पुरुष होता है जीवात्मा होता है तो ये अर्थ हुआ जब तक वो जीवित है तब तक और जब शरीर छूट जाएगा तब भी उसकी यही स्थिति रहेगी सारे शरीर आदि पदार्थों से छूट के फिर मोक्ष में तो अकेला हो ही जाना तब उसका नाम केवल ही है अकेला इसी केवल केवली शब्द का भाव बनाएंगे तो केवल्यम मोक्ष छूट गया अब वो किसी प्रकृति के पदार्थ के बंधन में नहीं है तब गुणों के संबंध से पूरी तरह छूट जाता है तब प्रकृति उसको परेशान नहीं कर सकती मोक्ष अवस्था में ये है सात अनुभूतियां उसको जिसको ये विवेक ख्याति अविकलवा प्राप्त हो गई इसको जीवन मुक्त बोलते इसको हाँ इसको जीवन मुक्त कहेंगे विदेह विदेह नहीं अच्छा। है तो शरीर में अभी अच्छा। पर यह जीवन मुक्त है जीते जी मुक्त जी भी राय और मुक्ति की योग्यता कंप्लीट हो चुकी है सदे हाँ विदेह नहीं सदे है अभी तो देह सहित है अभी तो <laughs> और जब शरीर छूट जाएगा तब विदेह हो जाएगा तब पूर्ण मुक्ति हो जाएगी ये जीवन मुक्ति है शरीर छूटने पर पूर्ण मुक्ति होगी ठीक है आगे पढ़े बोलिए शंका है तो तो जो एक मेधा बुद्धि है हम्म। तो उसका विशेष संबंध नहीं आता इंद्र कि जो सब प्रकार का ज्ञान शास्त्रों का वगैरह उस पर अधिकार करके तो मेधा बुद्धि तो पहले चली गई ना इससे हाँ। ये तो अंतिम स्तर है मेधा बुद्धि तो जब वो शास्त्रों को पढ़ता है अध्ययन करता है पाठों को याद करता है सब अष्टांग योग का ध्यान रखता है व्यवहार में गलतियां नहीं करता है हर जगह सावधान रहता है कहीं यम नियम का भंग ना हो मेधा बुद्धि तो उस स्तर पर है हर चीज को अच्छी तरह याद करना फटाफट याद करना बढ़िया उपस्थित रखना समय पर काम लेना यह है मेधा बुद्धि इससे तो बहुत ऊपर निकल गया वो अब तो पूरा काम खत्म हो गया उसका सब क्लेश व्लेश सब मार डाले अविद्या सब खत्म कर दी राग सब नष्ट हो गया अब तो ये फाइनल स्टेज और वो बहुत पहले की स्थिति है वेदा वाली हम्म। ठीक है ये सात जो बातें हैं ना एक एक शब्दों में कैसे कह सकते हैं क्या समझो पहला जो बताया संक्षेप से हाँ संक्षेप से संक्षेप से यूं कहेंगे कि हाँ। उसने सारे दुख को जान लिया संसार में कहा दुख छुपा है पूरा समझ लिया हम्म। एक बात हम्म। दुख के जो कारण है वो कारण भी पूरे समझ में आ गए और कारणों को पूरा मार डाला ये दूसरी अनुभूति है जितने भी उसके अविद्यादि कारण थे दुख के सब कारण खत्म कर दिए तीसरा उसने मोक्ष के आनंद का अनुभव कर लिया समाधि में ये तीसरी अनुभूति चौथी अनुभूति मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय था तत्व ज्ञान मजबूत तत्व ज्ञान वो उसको हाथ में आ चुका है पूरा कंप्लीट चार हो गई पांचवी क्या थी कि मन के ऊपर जो भोगों का दबाव था कि ये चीज घसीट रही है वो खींच रही है वो संपत्ति खींच रही है वो पद मुझे घसीट रहा है कि तू ये ले ले और वो ले ले ये उसकी समस्या खत्म हो गई मतलब जो लोगों की आज समस्या है ना दिल है के मानता नहीं <laughs> दिल मांगे <laughs> दिल है के मानता नहीं ये समस्या खत्म है दिल खूब मानता है वो जैसा कहेगा दिल वैसा ही करेगा तो वो उसकी समस्या हट गई और छठी है कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा और सातवीं है कि मैं शरीर से बिल्कुल छूट गया हूं मैं अकेला हूं मैं अलग हूं शरीर सब अलग है ये एक एक वाक्य में बोले तो ऐसी सात अनुभूतियां उसको होती ठीक है अगली पंक्ति पढ़िए एताम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रांत भूमि प्रज्ञाम प्रज्ञाम अनुपश्यन अनुपश्यन पुरुष पुरुष कुशल कुशल इति आख्यायते इति आख्यायते तो कह रहे हैं एताम सप्त विधाम इस सात प्रकार की जो ऊपर बताई प्रांत भूमि प्रज्ञाम उच्च स्तर की अनुभूतियों को ये ऊंचे उच्च स्तर की जो सात अनुभूतियां हैं इन अनुभूतियों को अनुपश्यन देखता हुआ महसूस करता हुआ अपने जीवन में प्राप्त करके पुरुष वो जीवात्मा जिसने ये सात अनुभूतियां प्राप्त कर ली कुशल इति आख्याय थे उसका नाम है कुशल वो है एक्सपर्ट बढ़िया परफेक्ट आदमी वही ये जिसको सबसे सफल व्यक्ति माना जाए वो है सफल व्यक्ति ठीक है तो अब जो जीवन मुक्त हो गया वो भी कुशल है और जब मोक्ष में चला जाएगा शरीर छोड़ के तब भी उसका नाम कुशल है आगे देखते हैं प्रति प्रसवे प्रति प्रसवे अपी चित्त मुक्त मुक्त कुशल कुशल इति एव इति एव भवति भवति गुणातीतत्वात् कोई आदमी ट्रैफिक में फंस गया रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया उसमें फंस गया उसके पास टू व्हीलर था बाइक थी अब कई तो बेचारे फंसे ही रहते हैं और कई बड़े चतुर होते हैं इधर से उधर से कन्नी काट के फटाफट घर पहुंच जाते हैं जो इधर से उधर से रास्ता निकाल के कन्नी काट के घर पहुंच गया तो वो एक्सपर्ट ड्राइवर है कि नहीं तो ये एक्सपर्ट ड्राइवर है लोग तो अभी पड़े हैं यहाँ ट्रैफिक में संसार में और वो फटाफट फटाफट कन्नी काट के मोक्ष में पहुंच गया अपने घर पहुंच गया तो जो शरीर छोड़ के मोक्ष में चला गया बस उसका नाम भी कुशल ही है वही परफेक्ट है भीड़ में से बाहर निकला है तो ये पंक्ति का देखिए प्रति प्रसवे अपनी चित्त चित्त के नष्ट हो जाने पर शरीर छूट जाने पर चित्त आदि सब चीजें अभी पूरा दोनों शरीर तीनों शरीर उससे अलग हो गए जीवात्मा के ऐसा हो जाने पर मुक्त कुशल इति एवं भवती तो वो पूर्ण मुक्त हो गया पहले जीवन मुक्त था अब शरीर छूटने पर पूर्ण मुक्त हो गया उसका नाम भी कुशल है क्यों गुणातीत तत्वादि गुणों से परे छूट गया अतीत हो गया परे हो गया अब गुण उसको कुछ नहीं छेड़ सकते कोई दबा नहीं दबा नहीं सकते दुख नहीं दे सकते इसलिए वो कुशल है तो जो प्रकृति के दुख से छूट जाए वही कुशल देखो संसार में कितने कुशल लोग हैं <laughs> जो छूट पाएंगे सूत्रार्थ हो गया ना उस व्यक्ति की सात प्रकार की उच्च स्तर की बुद्धि होती है अर्थात अनुभूतियां होती हैं जिसको पक्की तत्व ज्ञान विवेक ख्याति प्राप्त हो गई तो अब हमको क्या करना हमारा लक्ष्य क्या रहा विवेक ख्याति को प्राप्त करना वही हमको मोक्ष तक पहुंचाएगी वही उपाय है मोक्ष का विवेक ख्याति प्राप्त करो तो अब यहां से नया प्रसंग शुरू होता है कि विवेक ख्याति को प्राप्त कैसे करें ये तो डेस्टिनेशन बता दिया लक्ष्य बता दिया यहां तक पहुंचे अब तो खड़े तो यहां पर है पूना में पूना से कहां से चले कैसे चले खड़े तो गृहस्थ में है कोई वानप्रस्थ में खड़ा है कोई गृहस्थी में खड़ा है कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी जो भी है जैसे स्तर पर भी खड़ा है उसको वहां से आगे बढ़ना है और मोक्ष तक पहुंचना है तो अब उसका रास्ता बताएंगे शुरुआत कैसे करें कैसे कैसे आगे बढ़े विवेक ख्याति तक कैसे पहुंचेंगे भूमिका अगले सूत्र की सिद्धा भवती सिद्धा भवती विवेक ख्यातिर विवेक ख्यातिर हानोपाय हानोपाय इति व्यास जी महाराज कहते हैं भूमिका में सूत्र की ये जो हान का उपाय है विवेक ख्याति अविप्लवा सिद्धा भवती ये प्राप्त हो सकती है ऐसा मत समझना मोक्ष बहुत कठिन है या असंभव है कई लोग कहते साहब अपने बस का नहीं ये तो बहुत कठिन है घर छोड़ो संपत्ति छोड़ो परिवार छोड़ो सन्यासी बनो तभी तो कहते हैं ना वो जो कि घर गृहस्थी में बैठे बैठे सीधा मोक्ष हो जाएगा उनको छोड़ने से डर लगता है छोड़ना नहीं चाहते बहुत कठिन है साहब तो व्यास जी कह रहे हैं कोई बात नहीं कठिन है तो क्या हुआ असंभव नहीं है वैराग्य प्राप्त करना असंभव नहीं है मोक्ष प्राप्त करना असंभव नहीं है हो जाएगा तो विवेक ख्याति जो मोक्ष का उपाय है वो प्राप्त हो सकती है थोड़ी हिम्मत बनाओ उत्साह बनाओ सब हो जाएगा ऐसे जोर लगाओ परंतु न च सिद्धि सिद्धि अंतरेण अंतरेण साधनम साधनम इति आरभ्य थे आरभ्य कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं कोई ऊंची नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं कोई ऊंचा धन कमाना चाहते हैं तो साधन के बिना तो नहीं प्राप्त कर सकते ये तो सीधी कॉमन सेंस की बात है कोई भी अचीवमेंट हो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे तो कहते हैं साधनम अंतरण सिद्धि न भवती साधन के बिना किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती इति तद आरभ्य थे अब इस विषय को आरंभ करते तो विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी उसके साधन बताए जाएंगे सूत्र अट्ठाईस बोलिए योग योग अंग अंग अनुष्ठान अनुष्ठान अशुद्धि क्षय अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते अविवेक ख्याते सूत्रकार सुनिए योग अंग अनुष्ठान योग के अंगों का अनुष्ठान करने से आचरण करने से अनुष्ठान आचरण प्रैक्टिकल केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा थ्योरी तो सीख ली फैक्ट्री ऐसे लगानी मशीन यहां से लानी ऑर्डर ऐसे लेना बिक्री ऐसे करनी माल ऐसे बेचना प्रोडक्शन ऐसे करना लेबर ऐसी चाहिए थ्योरी सारी सीख ली और प्लॉट आज तक खरीदा नहीं फैक्ट्री के लिए मशीनरी कभी लाए नहीं लेबर ढूंढी नहीं प्रैक्टिकल कुछ नहीं तो बताओ व्यापार चलेगा तो बिना प्रैक्टिकल के तो कुछ होता नहीं तो कहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करो प्रैक्टिकल करो आचरण करो उससे क्या होगा दो लाभ होंगे पहला अशुद्धि क्षय अशुद्धि का तो नाश होगा अशुद्धि मतलब अविद्या अविद्या वही तो हमारा अंतिम शत्रु है तस् हेतु अविद्या दुख का अंतिम कारण तो अविद्या है तो इस आठ अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश होगा <coughs> और क्या होगा दूसरा ज्ञान दीप्ति ज्ञान का विकास होगा तो ये अष्टांग योग का आचरण करना पड़ेगा उसी से होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है नो ऑप्शन कोई विकल्प नहीं ये ज्ञान का विकास होता जाएगा कहां तक होगा अविवेक ख्याते विवेक ख्याति तक वहां तक हमको ज्ञान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा विवेक ख्याति तक पहुंच जाएंगे बस फिर उसको पक्का कर लेंगे वही हमको मोक्ष में पहुंचाएगा तो अष्टांग योग साधन हुआ यही करो आज करो दस जन्म बाद करो एक करोड़ जन्म बाद करो यही करना और कोई विकल्प नहीं अब आपकी इच्छा है कब करना जितनी देर लगाएंगे उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे तो लोग कहते हैं साहब जल्दी क्या है मोक्ष कहीं भागे जा रहा है क्या <laughs> चले जाएंगे मोक्ष में अभी खा पी तो ले अभी संसार के सुख तो ले लें मोक्ष कहीं भागा थोड़ी जा रहा दस जन्म बाद जाएंगे और क्या होगा तो हम कह रहे हैं मोक्ष तो नहीं भागा जा रहा वो कहीं नहीं जा रहा आप एक करोड़ जन्म बाद जाओ तब भी मिलेगा ऐसी कोई चिंता नहीं वो भागता नहीं है पर आपकी समस्या जरूर बढ़ेगी आप जितनी देर लगाएंगे उतने दुख आपको अधिक भोगने पड़ेंगे बस इतनी सी बात है अब बुद्धि दे रखी है भगवान ने उसका लाभ उठाओ थोड़े दुख भोगना या ज्यादा भोगना को आप जानो थोड़े भोगने तो फिर जल्दी करो जितनी जल्दी करेंगे उतने दुख कम भोगने पड़ेंगे जितनी देर लगाएंगे जितने ज्यादा जन्म लेंगे उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे उतने फिर आगे नए नए खतरे भी उठेंगे भाई इस जन्म में तो बुद्धि ठीक चल रही है कुछ योगाभ्यास समझ में आ रहा है और अगले जन्म में फिर वो सांप सीढ़ी वाले खेल में सांप ने काट लिया तो <laughs> फिर नीचे आ जाएंगे वो भी तो खतरा है ना इसलिए देर नहीं लगानी चाहिए बुद्धिमत्ता की बात यह है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए लोगों को हर काम में जल्दी ट्रेन में चढ़ना हो तो जल्दी अब उतरना हो स्टेशन पे ट्रेन से तो भी जल्दी है बस में चढ़ना हो तो भी जल्दी है बस से उतरना हो तो भी जल्दी है मॉल में जाओ शॉपिंग करनी हो तो भी जल्दी है बाग बगीचे में जाओ वहां भी जल्दी है और कोई भेड़पूरी खानी हो वहां भी जल्दी है कुछ भी करना हो सब काम में जल्दी नौकरी प्राप्त करनी हो उसमें भी जल्दी है, है? शादी करनी हो उसमें भी जल्दी है और यहाँ तो मरने में भी जल्दी लगा रखी कई लोगों ने वो सुसाइड करते हैं कूद के सब काम में जल्दी है मोक्ष की कोई जल्दी नहीं है वो कहीं भागा थोड़ी जा रहा है चले जाएंगे तो सूत्रकार क्या कहना चाहता है वो कहता है जैसे और सब काम में आप जल्दी करते हैं इसमें भी जल्दी करो इसमें क्यों देर लगाते हाँ कठिन तो है पर करना तो पड़ेगा करना तो यही पड़ेगा दूसरा कोई छोटा रास्ता हो और शॉर्टकट हो तो हम भी वही पकड़ ले आप भी पकड़ लो हम भी पकड़ ले और कोई है ही नहीं करना तो यही पड़ेगा इसलिए करो रुद्र का हो गया योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश होता जाएगा विद्या की वृद्धि होती जाएगी कहां तक होगी विवेक ख्याति तक और जब वो विवेक ख्याति हाथ में आ जाएगी पक्की हो जाएगी फिर मोक्ष हो जाएगा इसलिए हमको अष्टांग योग का अभ्यास करना ये करना भाष्य पढ़िए योगांगानी योगांगानी अष्ट अष्टौ अभिधायिष्यमाणानी अभिधायिष्यमाणानी भाष्यकार कहते हैं योग के अंग हैं अष्टौ आठ योग के आठ अंग हैं अभिधायिष्यमाणानी अभी आगे कहे जाएंगे अगले सूत्र से फिर आठ अंग बताए जाएंगे आठ अंग हैं कौन कौन से हैं कैसे कैसे क्या उनका स्वरूप है कैसे कैसे पालन करना सब विस्तार से आगे बताएंगे वो आठ अंग हैं तेषाओं अनुष्ठान अनुष्ठान पंच पर्वण पंच पर्वण विपर्य विपर्य अशुद्धि अशुद्धि क्षय क्षय नाश तेषाम अनुष्ठानात् उन आठ अंगों का अनुष्ठान करने से आचरण करने से प्रैक्टिकल करने से पंच पर्वणों पांच पर्वों वाला पांच विभागों वाला विपर्य मिथ्या ज्ञान अविद्या अविद्या के पांच पर्व हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब अविद्या ही अविद्या और उसका परिवार है तो इस प्रकार से जो पांच भाग वाली अविद्या है जो अशुद्धि रूप है उस अशुद्धि रूप अविद्या का क्षयो नाशा उसका नाश हो जाएगा तो अष्टांग योग करें अविद्या का नाश होगा तत्क्षये तत्क्षये सम्यक् ज्ञानम सम्यक् ज्ञानम सम्यक् ज्ञानस्य सम्यक् ज्ञानस्य अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी वैसे वैसे तत्व ज्ञान उभरता जाएगा प्रकट होता जाएगा बढ़ता जाएगा मजबूत होता जाएगा प्रभावशाली होता जाएगा तो इस योग के अनुष्ठान से अष्टांग योग के अनुष्ठान से दोनों काम होंगे अविद्या का भी नाश होगा विद्या की वृद्धि भी होगी दोनों काम होंगे एक साथ इसलिए इसको करना है इसी को आगे खोलते हैं समझाते हैं यथा यथा च साधनानि साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तथा तथा तनुत्व तनुत्व अशुद्धि अशुद्धि आपद्यते आपद्यते जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता रहेगा वैसे वैसे अशुद्धि तनुत्व आपद्य थे कमजोर होती जाएगी अविद्या घटती जाएगी कमजोर होती जाएगी उसकी शक्ति कम होती जाएगी आज हमको ज्यादा परेशान करती है फिर कम करेगी शक्ति घट जाएगी उसकी यथा यथा च यथा यथा क्षीयते क्षीयते तथा तथा तथा तथा क्षय क्रम क्षय क्रम अनुरोधिनी अनुरोधिनी ज्ञान से ज्ञान अपि दीप्तिर दीप्तिर विवर्धते विवर्धते और जैसे जैसे अविद्या क्षीयते क्षीण होती जाएगी कमजोर पड़ती जाएगी तथा तथा वैसे वैसे क्षय क्रम अनुरोधिनी अविद्या के क्षय के क्रम के अनुसार मतलब जैसे जैसे अविद्या यूं घटती जाएगी वैसे वैसे विद्या बढ़ती जाएगी ज्ञान स्यापी दीप्ति ज्ञान का भी विकास विवर्धते वो भी होता जाएगा विकास होता जाएगा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा अविद्या घटती जाएगी इसको जिस पंक्ति से अभी बताया उन्होंने इसको समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बाग बगीचे में बच्चे खेलते हैं उनके खेलने के कई साधन होते हैं खिलौने होते हैं झूले होते हैं कोई ऐसे ऊपर नीचे वाला झूला होता है कोई यूं गोल घूमने वाला होता है एक इन झूलों में खेलों में एक साधन होता है जिसको बोलते हैं सी सॉ सी सॉ एक बीच में पाइप होती है उसके ऊपर एक फट्टा होता है लंबा सा एक फट्टे के किनारे पर एक बच्चा बैठता है उस फट्टे के दूसरे किनारे पर दूसरा बच्चा बैठता है और वो ऐसे ऐसे झूलते हैं दोनों ऐसे ऐसे झूलते हैं हम्म। हाँ। एक साइड नीचे आती है तो दूसरी साइड ऊपर जाती है फिर वो साइड नीचे आती है तो ये ऊपर जाती है तो ये ये ऐसे समझना चाहिए अविद्या यहां है और विद्या यहां है तो जैसे जैसे अविद्या घटती जाएगी ये विद्या बढ़ती जाएगी उसी बच्चे के खिलौने की तरह से सीसाव की तरह अविद्या घटती जाएगी विद्या बढ़ती जाएगी फिर दोनों बराबर लेवल पे आ गए आधी अविद्या घट गई आधी विद्या बढ़ गई दोनों बराबर हो गए फिर अविद्या और घटेगी तो विद्या बढ़ती जाएगी तो ये परड़ा नीचे आ जाएगा ये परड़ा ऊपर चला जाएगा ऐसा होगा तो जिस क्रम से अविद्या नीचे आती है उसी क्रम से विद्या बढ़ती है ये बताया तथा क्रम अनुरोधिनी तथा क्षय क्रम अनुरोधिनी ज्ञान श्यापी देवतिर विवर्त तो उसी तरह से वो क्रमशः बढ़ती जाती है ज्ञान की देवती विकास सा खलु एषा सा खलु एषा विवृद्धि विवृद्धि प्रकर्षम प्रकर्षम अनुभवती अनुभवती अविवेक ख्याते अविवेक ख्याते तो ये जो ज्ञान की वृद्धि है ज्ञान का विकास है प्रकर्षम अनुभवती प्रकर्ष का अनुभव करती है उच्च स्तर पर पहुंच जाती है कहां तक अविवेक ख्याते है विवेक ख्याति तक तो विवेक ख्याति इसकी फाइनल लिमिट है वहां तक ये ज्ञान बढ़ता जाता बढ़ता जाता और वहां तक पहुंच जाता क्या होगा विवेक ख्याति में क्या होगा आगुण पुरुष पुरुष स्वरूपम स्वरूपम क्या है स्वरूप विज्ञान स्वरूप विज्ञान इत्यर्थ इत्यर्थ तो विवेक ख्याति को फिर खोला जैसे पहले समझाया था सत्य पुरुष अन्यता ख्याति यहाँ थोड़े दूसरे शब्दों में लिख दिया आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानार्थ इत्यर्थ ये अभिप्राय है गुण सतरजतम और पुरुष जीव और ईश्वर तो दोनों हो गए और जीव ईश्वर दो पुरुष हो गए और एक प्रकृति हो गई गुण शब्द से तो तीन वस्तु फिर हो गई तो गुण और पुरुष स्वरूप के विज्ञान तक यानी प्रकृति जीव और ईश्वर तीनों का अलग अलग ज्ञान हो जाए वहां तक ये ज्ञान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसी अष्टांग योग के आचरण से ठीक है योगांगानुष्ठानम योगांगानुष्ठानम अशुद्धेर अशुद्धेर वियोग कारणम वियोग कारणम यथा यथा परशु परशु छेद्यस्य छेद्यस्य परशु कहते हैं कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा छेद्य मतलब काटने योग्य लकड़ी कुल्हाड़े से लकड़ी काटते हैं तो कुल्हाड़े से क्या करते हैं लकड़ी के ऊपर अटैक करते हैं और लकड़ी कट जाती है टूट जाती है फट जाती है अलग हो जाती है नष्ट हो जाती है वो स्वरूप नहीं रहता पहले वाला कुल्हाड़ा मारने पर लकड़ी फट जाती है टूट जाती है तो जैसे कुल्हाड़ा छेद के विनाश का कारण है वियोग का कारण है अलग कर देता है लकड़ी को इसी तरह से योग अंगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण ये जीवात्मा से अविद्या को अलग कर देता है कुल्हाड़े की तरह फाड़ के अलग कर देता है एक काम किया इसने अष्टांग योग ने और एक काम और भी करेगा विवेक ख्यातेस्तु विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारण प्राप्ति कारण यथा धर्म यथा धर्म सुखस्य सुख यही जो अष्टांग योग है विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है एक तरफ वियोग का कारण है अविद्या का और एक तरफ तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कारण है दो काम कर रहा है जैसे धर्म सुख से जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है धर्म का आचरण करो सुख मिलेगा तो उसी तरह से अष्टांग योग प्राप्त आचरण करो विद्या मिलेगी तत्व ज्ञान मिलेगा उसकी प्राप्ति का यह कारण है तो एक ही चीज दो वस्तुओं का कारण बनी हुई है न अन्यथा कारणम न अन्यथा कारणम और कोई कारण नहीं है और ये तक अष्टांग योग हम्म। और कोई कारण नहीं है दो प्रकार का कारण है अविद्या का नाश करने का कारण है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कारण है तो क्या और भी कारण होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं कुल मिलाकर के नौ कारण होते हैं वो सब बताए जाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद <laughs> विश्राम भी कर लो थक गए होंगे पांच मिनट विश्राम चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं कति च एतानि कारणानि शास्त्रे शास्त्रे भवंती कहते हैं शास्त्र में एतानी कारणानी कति भवंती ये सारे कारण मिलाकर कितने होते हैं जैसे आपने दो कारण बताए वियोग कारण और प्राप्ति कारण योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या के वियोग का कारण है और शुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है तो दो कारण तो हो गए वियोग कारण प्राप्ति कारण इस तरह से और भी कोई कारण होते हैं क्या कुल मिलाकर कितने कारण होते हैं ये प्रश्न उठाया उत्तर देते हैं नव एव नव एव इत्याह इत्याह तो सिद्धांति ने कहा भाई नौ कारण होते हैं कुल मिलाकर के तद यथा तद यथा जैसे कि वो नौ कारण अब गिनाए जाएंगे एक श्लोक के रूप में बताते हैं उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तय विकार प्रत्यय आप्तय वियोग अन्यत्व धृतय वियोग अन्यत्व धृतय कारण नवधा स्मृत नवधा नौ प्रकार के कारण नवधा स्मृतम ऐसे नौ प्रकार के कारण बताए जाते हैं एक है उत्पत्ति कारण दूसरा है स्थिति कारण तीसरा अभिव्यक्ति कारण चौथा विकार कारण पांचवा प्रत्यय कारण छठा आपति कारण मतलब प्राप्ति कारण सातवां वियोग कारण आठवां अन्यत्व कारण और नौवां धृति कारण ऐसे नौ प्रकार के कुल कारण होते हैं इनके उदाहरण देकर समझाएंगे तत्र उत्पत्ति कारणों तत्र उत्पत्ति कारण मनोभवती मनोभवती विज्ञान से विज्ञान तो उत्पत्ति का कारण कैसे होता है उसका उदाहरण देते हैं जैसे ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन होता है आप मेरी बात सुन रहे हैं आपको मेरी बात का ज्ञान हो रहा है क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आपका मन मेरे शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है आपके कान के साथ जुड़ा है आपका मन और आपका कान मेरे शब्दों के साथ जुड़ा है इसलिए आपको मेरे शब्दों का ज्ञान हो रहा है ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है तो जैसे मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है ऐसे एक प्रकार का ये कारण होता है उत्पत्ति कारण दूसरा स्थिति कारण बोलिए स्थिति सह मनस मनस पुरुषार्थता पुरुषार्थता शरीर से शरीर से इव इव आहार आहार इति इति तो स्थिति का कारण यह है कि जब तक कोई कारण बना रहेगा तब तक किसी दूसरी वस्तु की स्थिति बनी रहेगी कारण हट जाएगा तो वो स्थिति भी नष्ट हो जाएगी तो उसके उदाहरण देते हैं पुरुषार्थता मनसा स्थिति कारण पुरुष का जो प्रयोजन है क्या क्या प्रयोजन भोग और भोग और दो प्रयोजन है जीवात्मा तो जब तक जीवात्मा के ये दो प्रयोजन बने रहेंगे तब तक मन की स्थिति बनी रहेगी तब तक मन भी टिका रहेगा नष्ट नहीं होगा और अगला अगला जन्म मिला मिलता रहेगा ऐसे जन्म मरण चक्र चलता रहेगा तो मन की स्थिति का कारण है पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग जब ये भोग और अपवर्ग समाप्त हो जाएगा प्रयोजन खत्म हो जाएगा मन भी नष्ट हो जाएगा फिर मन नहीं स्थिर रहेगा टूट जाएगा इसी तरह से शरीर से आहार इव शरीर की स्थिति का कारण है आहार जब तक भोजन मिलता रहेगा जीते रहेंगे खाते रहेंगे जीते रहेंगे रोटी खाना बंद कर देंगे भूखे मर जाएंगे शरीर नष्ट हो जाएगा तो वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए अब कोई यहां छल का प्रयोग करेगा कि साहब एक हजार साल तक खाना खाते रहेंगे तो एक हजार साल तक शरीर बना रहेगा <laughs> तो ऐसे छल का प्रयोग नहीं करना चाहिए वक्ता का अभिप्राय देखना चाहिए भाई शरीर जितना चल सकता है सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल सौ साल अस्सी नब्बे सौ साल तक चल सकता है ये तब तक टिकेगा जब तक इसको खाना मिलता रहे तो अस्सी सौ साल तक यदि खाना मिलता रहा तो ये टिका रहेगा और बीस साल में खाना बंद कर दो तो जल्दी खत्म हो जाएगा ये अभिप्राय है ना कि जब तक खाना मिलेगा तब तक शरीर टिकेगा ये नहीं कहना चाहते ऐसा जानना चाहिए अगला है अभिव्यक्ति कारणों अभिव्यक्ति कारण यथा यथा रूपस्य रूपस्य आलोक आलोक तथा तथा रूप ज्ञानम रूप ज्ञानम तीसरा कारण अभिव्यक्ति का कारण अभिव्यक्ति मतलब प्रकट होना कोई चीज प्रकट होती है हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो हमें उसकी अभिव्यक्ति हुई जानकारी हो गई तो जानकारी करने का क्या क्या कारण पहला बताते हैं रूपस्य आलोक रूप की जानकारी तब होती है जब प्रकाश हो ट्यूबलाइट का प्रकाश हो सूर्य का प्रकाश हो अग्नि का प्रकाश हो कोई भी प्रकाश होना चाहिए तब हमें कोई वस्तु कमरे में रखी हुई दिखेगी अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगी तो वस्तु की अभिव्यक्ति का कारण क्या हुआ प्रकाश एक कारण तथा उसी तरह से रूप ज्ञानम रूप का भी ज्ञान होना चाहिए अर्थात व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि ये रूप है इसको रूप गुण कहते हैं इसको शब्द गुण कहते हैं इसको गंध गुण कहते हैं ये जानकारी भी हो और साथ साथ प्रकाश भी हो तब हमको उस रूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो रूप का ज्ञान होना और प्रकाश होना ये दोनों कारण है अभिव्यक्ति के ठीक है आगे चौथा कारण बताते हैं विकार कारणम विकार कारणम मनसो विषयांतरम मनसो विषयांतरम यथा अग्नि यथा अग्नि पाक्यस्य पाक्यस्य तो विकार का कारण क्या मन के विकार का कारण है विषयांतर हो जाना अभी आप सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आपका मन इस विषय में टिका हुआ है तो ठीक है आपको ज्ञान ठीक हो रहा है और अगर आपने मन में दूसरा विचार उठा लिया कोई स्मृति उठा ली कोई व्यापार की नौकरी की कोई और घर परिवार की सांसारिक स्मृति आदि उठा ली तो आपके मन में विकार आ जाएगा विषयांतर को सोचते ही विकार आ जाएगा और जो ये लाभ हो रहा है ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा विकृति आ जाएगी वो स्थिति बिगड़ जाएगी तो ये विषयांतर हो जाना ये मन के विकार का कारण है उदाहरण देते हैं यथा अग्नि पाक्य जैसे अग्नि भोजन के विकार का कारण है पाक्य माने जो पकाया जाए दाल चावल सब्जी रोटी ये पकाने योग्य है इसका नाम है पाक्य तो इसके पाक्य के अर्थात भोजन के विकार का कारण अग्नि है कच्ची दाल है चूल्हे पर रख दो आग जला दो उसमें अंतर आ जाएगा पक जाएगी इस तरह से वो विकार का कारण हुआ अगला कारण प्रत्यय कारणम प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से अग्नि ज्ञान से का अर्थ है ज्ञान तो एक ज्ञान का भी कारण होता है जैसे धुएं का ज्ञान अग्नि के ज्ञान का कारण है आपने धुआं देखा और अग्नि को नहीं देखा तो धुएं का ज्ञान हुआ नेत्र से इस धुएं के ज्ञान से अग्नि को देखे बिना उसका ज्ञान हो गया तो धुएं का ज्ञान अग्नि के ज्ञान का कारण हुआ अनुमान प्रमाण में जैसे हम लगाते हैं अनुमान उस तरह से तो एक प्रत्यय कारण भी होता है ज्ञान का कारण फिर अगला है प्राप्ति कारणम प्राप्ति कारण योग अंग अनुष्ठानम योगांग अनुष्ठान विवेक ख्याते विवेक ख्याते इसका वही उदाहरण दे दिया जो प्रसंग चल रहा है कि प्राप्ति का भी कारण होता है जैसे कि योग के अंगों का अनुष्ठान करना ये विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है और एक उदाहरण पहले दिया था धर्म सुख से धर्म आचरण सुख की प्राप्ति का कारण है फिर कहते हैं वियोग कारण वियोग कारण तदेव तदेव अशुद्धे अशुद्धे वियोग का कारण क्या है तदेव वही योगांगानुष्ठान योग के अंगों का आचरण करना यही वियोग का भी कारण है किसके वियोग का अशुद्धे अशुद्धि क्या अविद्या के वियोग का ये कारण है अगला कारण पढ़ते हैं अन्यत्व कारण अन्यत्व कारण यथा यथा सुवर्ण कार सुवर्ण सुवर्णकार तो अन्यत्व का मतलब एक ही वस्तु है वो अलग अलग रूपों में हमको प्रतीत होती है दिखती है या उसका रूपांतर कर दिया जाता है उसका शेप चेंज कर दिया जाता है ये दो तरह से हो सकता है एक फिजिकल एक मेंटल दोनों स्तर पर हो सकता है तो पहले फिजिकल का उदाहरण देते हैं कि सुवर्ण से सुवर्ण कार अन्यत्व कारण सुनार के पास सोने का बिस्किट है अभी वो बिस्किट की शेप में है तो आपने कहा जी ये बिस्किट ले लो इसके कंगन बना दो उसने कहा ठीक है लाओ उसने बिस्किट लिया और उसका अन्यत्व कर दिया उसका रूप बदल के कंगन बना दिए चूड़ियां बना दी कोई गले का हार बना दिया तो सुनार सोने के अन्यत्व का कारण है उसका रूप बदल देता है ये तो हुआ फिजिकल भौतिक रूप से अब दूसरा है मानसिक रूप से एवं एवं एक स्त्री प्रत्यय स्त्री प्रत्यय अविद्या अविद्या मूढ़त्वे मूढ़त्वे द्वेषो द्वेषो दुःखत्वे दुःखत्वे रागः रागः सुखत्वे सुखत्वे तत्व तत्त्वज्ञानम् मध्यस्थ्ये मध्यस्थ्ये तो ये अन्यत्व कारण है ये मानसिक स्तर पर है यहां उदाहरण दिया कि एक स्त्री है ठीक है एवं एक स्त्री प्रत्यय हमने किसी व्यक्ति ने उस स्त्री को देखा हम्म। उसको ज्ञान हुआ कि ये स्त्री खड़ी है ठीक है स्त्री का ज्ञान हो गया अब मन की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग होती हैं हरेक के मन में उन भावनाओं से वो स्त्री उसको कई तरह की दिखेगी जिसके मन की भावना जैसी होगी उसको वैसी दिखेगी तो स्त्री के एक ही स्त्री के अनेक रूप हो जाएंगे तो कैसे होंगे अविद्या मूढ़त्व यदि किसी के मन में अविद्या है ठीक है और वो स्त्री को शुद्ध मानता है सुखदायक मानता है आदि आदि तो वो उसके पीछे पागल हो जाएगा अच्छा। मूढ़त्व मूढ़ हो जाएगा तेरे बिना मैं जी नहीं सकता मैं मर जाऊंगा ऐसे ऐसे <laughs> जैसे चलता फिल्मों में <laughs> वो उसके पीछे पागल हो जाएगा ठीक है अविद्या के कारण उसको स्त्री इस तरह की दिखती है द्वेशो दुखत्व अब स्त्री वही है एक मान लो किसी की पत्नी है और उसकी एक सौतन है दो स्त्रियां हैं एक पुरुष की कहीं कहीं हो जाती है ना तो जो दूसरी स्त्री है सौतन वो पहली स्त्री को देखती है उसको द्वेष होता है उससे द्वेष के कारण उसको वो दुखदायक दिखती है वही स्त्री पहले वाली स्त्री उसको तो पागल बना रही थी अविद्या के कारण वो मूड हो रहा था उसके पीछे दीवाना हो रहा था पर सौतन के लिए वही स्त्री दुखदायक हो जाती है क्योंकि उसको द्वेष है ठीक है अच्छा तीसरा राग सुखत्व <clears throat> उसके पति को उससे सुख मिलता है पत्नी से उसको राग हो जाता है उसको वो वैसी दिखती है राग वाली तत्व ज्ञानम माध्यस्थ है एक वैरागी है उसको तत्व ज्ञान है वह शरीर अशुद्ध है नाशवान है दुखदायक है रोगों का घर है उसको कोई राग नहीं मोह नहीं द्वेष नहीं कुछ नहीं वो अपना विरक्त रहता है माध्यस्थ मतलब न्यूट्रल मध्य स्थिति में रहता है राग भी नहीं द्वेष भी नहीं पीछे वाले स्तर पर किसी को राग हो रहा था किसी को द्वेष हो रहा था किसी को मोह मोह हो रहा था अविद्या रही थी तो तत्व ज्ञान के कारण उसको विरक्ति अनासक्ति ये स्तर उसका बनता है तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये अलग अलग स्वरूप दिखाने का कारण है अन्यत्व कारण अलग अलग प्रकार का ज्ञान एक ही वस्तु के अलग अलग रूप दिखा देता है ये एक कारण बताया ठीक है आगे चलते हैं धृति कारण धृति कारण शरीरम शरीरम इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम तानी च तानी धृति कारण मतलब धारण करने का कारण तो शरीरम इंद्रियाणाम धृति कारण शरीर इंद्रियों को धारण करने का कारण है क्योंकि इंद्रिया शरीर में ही टिकी है आंख नाक कान हाथ पांव शरीर में ही तो रहते हैं कहां जाएंगे तो शरीर इनको धारण कर रहा है ये शरीर धृति कारण हो गया इंद्रियों का तानी चतस्य और जो इंद्रिया है ये शरीर को धारण कर रही आंख फूट जाए कान बहरा हो जाए तो आदमी मर जाएगा आंख से दिखता नहीं कान से सुनाई नहीं देता तो उसका जीना मुश्किल है तो शरीर को धारण नहीं कर पाएंगी इंद्रिया इसलिए इंद्रिया शरीर को धारण कर रही है और शरीर इंद्रियों को धारण कर रहा है दोनों एक दूसरे के दृष्टि कारण है फिर आगे कहते हैं महाभूतानी महाभूतानी शरीराणाम शरीराणाम और जो पंच महाभूत है ये शरीरों को धारण कर रहे हैं अग्नि ना हो तो आदमी ठंड में अकड़ जाएगा मर जाएगा अन्न ना हो पृथ्वी आदि ना हो तो शरीर कैसे जीवित रहेगा तो भी मर जाएगा पानी नहीं हो तो भी मर जाएगा हवा नहीं हो तो पांच ही मिनट में शांति पाठ हो जाएगा <laughs> जल्दी हो जाएगा तो ये सारे पंचमाभूत शरीर को धारण किए हुए हैं इसको जीवित रखते हैं ये धृति कारण और आगे कहते हैं तानीच तानीच परस्परम परस्परम सर्वेशम सर्वेशम और पंचमाभूत आपस में एक दूसरे को धारण किए हुए आपस में भी एक दूसरे के सहयोग से ये ठीक ठाक चल रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु है वायुमंडल है उसके अंदर पृथ्वी ठीक ठाक टिकी हुई है तो ऐसे ही पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तब इसमें थोड़ा जल का भी सहयोग लिया गया थोड़ा अग्नि का सहयोग लिया थोड़ा वायु के कणों का सहयोग लिया ऐसे एक दूसरे को मिलजुल करके ये स्थापित करते हैं बनाते हैं धारण करते हैं उनकी स्थिति बनाए रखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तैर्य तैर्य यौन यौन मानुष मानुष दैवतानी दैवतानी च परस्परार्थत्वात्नी वाले मतलब कीड़े मकोड़े कुत्ता गधा भेड़ बकरी बिल्ली गाय घोड़ा हाथी ये सब तिरक वाले हैं और मानुष मतलब सामान्य मनुष्य शूद्र आदि फोर्थ क्लास फैमिली और देवता माने अच्छे विद्वान धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तो इस प्रकार से चाहे पशु पक्षी हो चाहे सामान्य मनुष्य हो चाहे देवता हो पढ़े लिखे विद्वान हो ये सब के सब परस्परार्थत्वात ये एक दूसरे के उपयोगी है एक दूसरे के सहयोगी है इसलिए एक दूसरे को धारण कर रहे हैं अगर शूद्र नहीं हो तो कारखाने में फैक्ट्री में काम कौन करेगा तो सेठ बेचारा खुद तो फैक्ट्री में मशीन चलाएगा नहीं तो सेठ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा मजदूरों से उसका जीवन टिका हुआ है अच्छा सेठ ना हो तो मजदूर फिर रोटी कहां से खाएगा उसको वेतन कौन देगा और काम कौन देगा तो सेठ ने मजदूरों को धारण कर रखा है मजदूरों ने सेठों को धारण कर रखा है पशु पक्षियों ने मनुष्यों को धारण कर रखा है पशु पक्षी ना हो तो दूध कहां से आएगा घी कहां से आएगा मक्खन मलाई मिठाई पनीर कहां से आएगा उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन तभी टिकेगा जब गाय घोड़ा कुत्ता गधा भेड़ बकरी सारे प्राणी हो घोड़े पे सवारी कर लेंगे गधे से बाहर ढो लेंगे कुत्ते से घर की रखवाली करा लेंगे गाय से दूध ले लेंगे फिर दूध से दही मक्खन मलाई सब होता जाएगा इस प्रकार से ये प्राणी हमको धारण कर रहे हैं और हम इनको खाना चारा देते हैं दारा दाना खिलाते हैं तो इनकी रक्षा होती है वरना गाय खुद तो खेती कर नहीं सकती खुद तो कोई फैक्ट्री चला नहीं सकती कोई उत्पादन नहीं कोई व्यापार नहीं नौकरी नहीं वो तो खड़ी आप कुछ खिला दो तो खा लेगी तो उसका जीवन चलेगा कुत्ता भी कोई व्यापार नहीं कर सकता न कोई भेड़ बकरी कुछ कर सकते हैं तो इनके जीवन की रक्षा हम करते हैं हमारे जीवन की रक्षा ये करते हैं इस तरह से दोनों एक दूसरे को धारण करते हैं ये धृति कारण हो गए आपस में दूसरे पर निर्भर है जी एक दूसरे पर एक दूसरे पर आदान प्रदान जी अब उपसंहार करते हैं एवं एवं नव कारणानी नव कारणानी इस प्रकार से कुल मिला के नौ कारण होते हैं जो ऊपर गिना दिए उदाहरण भी दे दिए तानी चानी च यथा संभवम यथा संभवम पदार्थांतरेशु पदार्थांतरेशु अपि अपि योज्यानि योज्यानि तो भाष्यकार कहते हैं हमने तो एक एक उदाहरण दिया है ऐसा ही दुनिया भर में अपने आप व्यवस्था कर लेना जहां जहां जैसी स्थिति दिखे वहां विचार कर लेना ये कौन सा कारण है ये कैसा कारण है नौ में से कौन सा कारण है अपने आप हिसाब लगाते रहना हमने तो उदाहरण बता दिए योगांगानुष्ठानम योगंगानुष्ठानम तु द्विधा एव द्विधा एव कारणत्वम कारणत्वम लभते लभते इति जो प्रसंग चल रहा है हमारा योग के अंगों का अनुष्ठान करना उसको फिर हम बता रहे हैं ये चीज तो नौ में से दो ही कारण के रूप में उपस्थित होती है दो ही कारणों के स्वरूप को प्राप्त होती है एक तो वियोग कारण और एक प्राप्ति कारण अविद्या का वियोग कर देगा और विद्या की प्राप्ति कराएगा ये अष्टांग योग का अनुष्ठान अर्थ भी हो गया भाष्य भी हो गया जी बोलिए प्राप्ति कारण में और फिर प्रत्येक कारण में भेद क्या प्राप्ति कारण है किसी चीज की अचीवमेंट हम्म। प्रत्येक कारण है ज्ञान का कारण किसी चीज को अलग अलग ढंग से जानना समझना तो प्रत्येक अर्थ है ज्ञान हमारे ज्ञान के आधार पर हमको एक ही वस्तु अलग अलग रूपों में ज्ञात होती है जैसे बताया था कि अविद्या मूढ़त्व द्वेषो दुखत्व हमारा भावना अलग अलग है तो वस्तु का स्वरूप भी हमें अलग अलग तरह से ज्ञात होगा तो ये तो प्रत्यय कारण हुआ प्रत्यय कारण था क्या था अन्यत्व कारण था वो अन्यत्व वो अन्यत्व कारण था प्रत्यय कारण धूम ज्ञान धूम के ज्ञान से हाँ धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान एक ज्ञान से दूसरे वस्तु का ज्ञान होता है तो यहाँ प्राप्ति नहीं है वस्तु की प्राप्ति कुछ नहीं है केवल ज्ञान हो रहा है धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ जबकि धर्म आचरण से सुख की प्राप्ति हुई कुछ अचीवमेंट है उपलब्धि है ऐसे ही योगांग अनुष्ठान करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी अचीवमेंट होगी थोड़ा और और नहीं खुला और और अंतर देखिए को देखकर जो हमें अग्नि का ज्ञान हुआ यहां पर कोई नई चीज प्राप्त नहीं हुई हमको अग्नि का ज्ञान पहले भी था एक नहीं पचास बार हमने देखा था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है ये जानकारी आज हमारे लिए कोई नई नहीं है पचास बार हम जान चुके और पचास बार प्रत्यक्ष भी कर चुके आज इक्यावनवी बार हमने धुएं को देखा तो आज इक्यावनवी बार धुएं को देखकर पिछले पचास बार का अनुभव याद आ गया और उस अनुभव के आधार पर हमको आज ये ज्ञान हो गया कि यहां धुआं दिख रहा है तो आग भी होगी निश्चित रूप से होगी इसमें कोई संशय नहीं है तो हमें जो अग्नि की जानकारी हुई कि अत्र अग्निरस्ति यहां पर इस समय अग्नि है ये कोई नई अचीवमेंट नहीं है ये तो हो गया ज्ञान का कारण प्रत्यय कारण जबकि प्राप्ति कारण में न्यू अचीवमेंट है पहले हमें पता नहीं था कि जीवात्मा के अंदर ये दूध दही मक्खन मलाई मिक्स नहीं होता है आज नई बात पता लगी तो नए ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए प्राप्ति कारण अलग चीज है और वो ज्ञान वाला कारण अलग चीज है प्रत्यय कारण तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये फिर प्राप्ति में आएगा यदि इंद्रिया सन्निकर्ष को लेंगे वो कारण प्रत्यक्ष में आ जाएगा वो प्राप्ति का कारण बनेगा इंद्रिया सन्निकर्ष जो होगा वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनेगा ठीक बात है वो प्राप्ति कारण बनेगा ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो नया नया ज्ञान प्राप्त होगा तो जो नया नया हो रहा है वो प्राप्ति कारण और जो पूर्व की स्मृति आ रही है और उसके आधार पे हम कुछ समझ रहे हैं वो होगा ज्ञान कारण प्रत्यय कारण ऐसा भेद करना होगा अब कुछ कुछ थोड़ा खुला ठीक बात और एक प्रश्न हाँ बोलिए मेरी रुचि थोड़ी ज्यादा है बोलिए बोलिए बोलिए जो मेधा बुद्धि है ना हम्म। तो वो योग क्या अनुष्ठान से आएगी या उसके लिए कुछ और कारण रहेगा उसके लिए योगांग अनुष्ठान भी कारण है वो भी कारण है ऐसा करने से बुद्धि का स्तर ऊंचा होगा कार्यक्षमता बढ़ेगी और वो अच्छी तरह याद करेगी स्मृति शक्ति बढ़ेगी इस अंगों के अनुष्ठान से तो मेधा का स्तर अच्छा बनता जाएगा ज्ञान का स्तर बनता जाएगा बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी तो एक लेवल पर आकर हम उसको मेधा बुद्धि नाम से कहेंगे ठीक है तो ये योग के अंगों के अनुष्ठान से ऐसा होगा और अन्य कारण भी होंगे पढ़ाई लिखाई करना नियमित रूप से करना सावधानी से करना आदि आदि वो अन्य कारण भी साथ जुड़ जाएंगे योगांग अनुष्ठान भी कारण रहेगा दोनों मिले जुले कारण रहेंगे तो जो याम में जो मंत्र है जी तो उस विशेष मंत्र से अगर हम ध्यान करें हम्म। जल्दी होगा सहयोग पुरुषार्थ करना पड़ेगा पुरुषार्थ तो करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो उससे जल्दी होगा ये ठीक है क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं हम्म। और उसका अर्थ भी जानते हैं हम्म। तो उसका हम पर प्रभाव पड़ता है अगर हम शब्द बोलते हैं और अर्थ का पता नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप चाइनीज भाषा में लेक्चर सुनते रहो रोज छह महीने तक आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप मराठी में सुनो तो पड़ेगा हिंदी में सुनो तो प्रभाव पड़ेगा संस्कृत में सुनो तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये भाषाएं आप जानते हैं समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं तो जब जो चीज हम समझते हैं उसका प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति रोज मंत्र पाठ करता है याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माँ मध्य मेधयाग्ने विनम कुरु स्वाहा उसको अर्थ का पता नहीं तो वो तो चाइनीज जैसा लेक्चर चाहे संस्कृत में बोलो चाहे चाइनीज में बोलो जब आता ही नहीं भाष्य उसका अर्थ समझ में नहीं आता तो उसका कोई प्रभाव नहीं जो इसका अर्थ जानता है कि जिस मेधा बुद्धि की कामना पूर्वज लोग करते थे प्राप्त करते थे उससे लाभ उठाते थे वही वैसी ही वही बढ़िया वेधा बुद्धि मुझे भी चाहिए हे भगवान मुझे जल्दी दो तो वो इसका अर्थ जब समझता है तो उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो पुरुषार्थ करेगा मुझे मेधा बुद्धि प्राप्त करनी है फिर वो कैसे होगी रेगुलर पढ़ाई करो रोज ध्यान करो यमनियम का पालन करो अष्टांग योग का अभ्यास करो आपकी बुद्धि मेधा बन जाएगी तो इस तरह से हम प्रार्थना भी करें और पुरुषार्थ भी करें तो जल्दी होगा हाँ, तो हर का भी उसमें आहार का भी बहुत सारे कारण बनते हैं जो नौ कारण है उनमें ढूंढ ढूंढ के जितने शक्य है वो इसी अष्टांग योग में सब आ जाएगा अष्टांग योग बहुत व्यापक है यम नियम का पालन करेंगे नियम नियम में शौच का पालन करेंगे मन को शुद्ध रखेंगे है स्वाध्याय करेंगे बार बार पढ़ेंगे तो सारी बातें हाथ हो गई इसमें अष्टांग योग से मेधा बुद्धि अपने आप बन जाएगी तो उससे ही पर्याप्त हो जाएगा काम ये पर्याप्त कारण है मेधा बुद्धि के बढ़ाने के लिए बनाने के लिए इससे हो जाएगा ठीक है तो अभी इसको विराम देते हैं समय के अनुसार पाठ भी पूरा हो गया फिर अष्टांग योग का नया प्रसंग एक एक की व्याख्या करेंगे अगली कक्षा में शाम से एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओ सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी आपस में भी नमस्ते करना हाँ ध्यान कराना है करना चलिए पांच मिनट ध्यान करेंगे प्रैक्टिकल हाँ चलिए बैठिए वही मैंने वो छूट जाता है <laughs> ठीक है तो पांच मिनट प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे आसन लगा लीजिए कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद मन में संकल्प कीजिए हमारा मन जड़ वस्तु है जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती ये जड़ मन कोई विचार उत्पन्न नहीं करेगा हम आत्मा हैं हम चेतन हैं चेतन वस्तु क्रिया करती है स्वयं करती है दूसरी वस्तु में भी क्रिया को उत्पन्न करती है तो हम चेतन आत्मा हैं मन में हम ही विचार उत्पन्न करते हैं अब हम सांसारिक विचार मन में उत्पन्न नहीं करेंगे केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे ऐसा संकल्प कीजिए प्रतिदिन अभ्यास करते समय सबसे पहले यही संकल्प कीजिए ध्यान में बैठते ही कि हमारा मन जड़ वस्तु है ये स्वयं विचार नहीं उठा सकता हम चेतन आत्मा हैं हम ही विचार उठाते हैं इस समय हम सांसारिक विचार नहीं उठाएंगे और ईश्वर का ही विचार मन में उठाएंगे ये संकल्प हर रोज करें अब सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय है मन में सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है बार बार सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है शून्य आकाश है दूसरी बात शून्य आकाश है पुण्य आकाश का मतलब खाली स्थान अंधेरा और खाली स्थान ये दो चीजें अपने मन में देखिए इस पूरे आकाश में अर्थात खाली स्थान में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है ध्यान की तैयारी चल रही है ईश्वर का चिंतन अब करेंगे इसी आकाश में छह वाक्य मेरे साथ बोलिए हे ईश्वर हे ईश्वर आप आप एक ही हैं एक ही हैं हे ईश्वर हे ईश्वर आप आप सर्वव्यापक हैं सर्वव्यापक हैं आप निराकार हैं आप निराकार हैं चेतन हैं चेतन हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं आप न्यायकारी हैं आप न्यायकारी हैं हे भगवान हे भगवान आप आप आनंद स्वरूप हैं आनंद स्वरूप हैं तो ये छह वाक्यों में हमने ईश्वर का स्वरूप अपने मन में स्थापित किया इसी निराकार स्वरूप का ही चिंतन लगातार चलना चाहिए इसका नाम है ध्यान ये ईश्वर का ध्यान है इस ध्यान के अंतर्गत हम दो तरह से ध्यान कर सकते हैं एक तो ऐसे ही सीधी सादी भाषा में ईश्वर के गुणों का चिंतन मनन वर्णन कथन करते रहें उसकी स्तुति प्रार्थना करते रहें दूसरा ढंग है किसी छोटे से मंत्र को लेकर उसका जप करें जप का मतलब बार बार दोहराना तो किसी मंत्र के माध्यम से भी हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं जब मंत्र बोलेंगे तो उसका अर्थ भी साथ बोलेंगे एक बार मंत्र बोलेंगे दूसरी बार उसका अर्थ बोलेंगे फिर मंत्र बोलेंगे फिर अर्थ बोलेंगे फिर मंत्र बोलेंगे फिर अर्थ बोलेंगे इस तरह से बारी बारी मंत्र और अर्थ के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए तो दोनों तरीके हैं जो भी अच्छा लगे उसी ढंग से ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं अभी इस समय हम एक छोटे से मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे मैं मंत्र बोलता हूं आप कृपया उसे सुने और बाद में दोहराएं। ओ न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए ओ हमें भी हमें भी न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए आप कभी किसी पर आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते अन्याय नहीं करते हम भी कभी किसी पर हम भी कभी किसी पर अन्याय न करें अन्याय न करें ओ न्याय हे ईश्वर आप आप न्यायकारी हैं न्यायकारी हैं हमें भी हमें भी न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए तो जैसी हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा ही दिन भर हमें पुरुषार्थ भी करना है अर्थात हम कह रहे हैं कि जैसे आप किसी पर अन्याय नहीं करते हम भी कभी किसी पर अन्याय न करें तो दिन भर सावधान रहना है कोई भी काम करने से पहले दो चार बार सोचना है कि कहीं हम दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहे ऐसे विचार करें कोई भी काम करें पहले ये विचार करें तो ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा अंदर से उत्तर मिलेगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है ये तो दूसरे पर अन्याय है ऐसे पता चल जाएगा ईश्वर आपकी सहायता करेगा और जैसे ही पता चले कि यह अन्याय है उस काम को वहीं रोक देंगे बंद कर देंगे अन्याय नहीं करेंगे तब ये पुरुषार्थ करते करते ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और हमें न्यायकारी बना देगा कोरी प्रार्थना से कुछ लाभ नहीं होगा पुरुषार्थ भी करना है दिन भर तब इसका पूरा लाभ होगा तो इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और भी मंत्र हैं फिर अगली बार उनका अभ्यास करेंगे आज इतना ही कहकर विराम दोनों हाथों को थोड़ा सा आपस में रगड़िए चार पांच बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए थोड़ा पलकों को सहलाइए अब हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं इसका इतना ही प्रयोजन है धन्यवाद